तो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने हजारों मनुष्य पैदा किए एक साथ हजारों मनुष्य हजारों की हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में हजारों स्त्रियां हजारों पुरुष हाँ, वो वैसे बाइबल वाला नहीं एक पुरुष एक स्त्री ऐसी दुनिया नहीं चलने वाली हाँ, हजारों पुरुष बनाए हजारों स्त्रियां बनाई इस तरह से फिर आगे वेद का ज्ञान दिया फिर वेद पढ़ाया लोगों को फिर वो उसमें बताया कैसे रहना कैसे खाना कैसे व्यवहार करना सब बाद में हुआ पहले हजारों की संख्या में पैदा हुए मनुष्य पुरुष भी और स्त्रियां भी युवा युवा युवा अवस्था एक ही देश में रहे या अलग अलग देश में शुरू में तो इकट्ठे एक ही जगह पैदा किए फिर आधे अनारे दो विभाग कैसे बाद में पढ़ पढ़ा करके फिर आगे फैलते गए भाई आगे आगे संख्या बढ़ती हुई तो उन्होंने घूम घूम के देखा और कौन सी जगह अच्छी है कहाँ रहना चाहिए ऐसे चलते गए चलते गए नए नए देश बनाते गए ऐसे फैल गए सारी दुनिया में तो आर्य और अनार्य के दो विभाग कैसे हो गए आर्य अनार्य तो हमेशा से ही क्या सृष्टि के आरंभ में कुत्ते गधे भेड़ बकरी नहीं थे थे या नहीं थे, ना वो तो चलो ठीक है पिछले पिछली सृष्टि के कर्मों से पैदा हुए जो अब मनुष्य पैदा हुए पहले पहले मनुष्य अमेचुनी सृष्टि वाले उनमें भी सारे लोग अच्छे थे क्या ये कुछ खराब भी थे तो पवित्र आत्मा ही आई सारी पवित्र कैसे होगी और बाद में अशुद्ध क्यों हो गई इसका कारण भी सोचना चाहिए मोक्ष से आने वाली मोक्ष से कहा है वो तो पिछली सृष्टि वाली पैदा हुई ना वो जैसे, जैसे हम रात को सो जाएंगे तो कल सुबह उठेंगे तो जो हम रात को सोए थे वही तो उठेंगे कल या नए दूध के धुल धुले हो जाएंगे जो आदमी चोर डाकू बेईमान रात को सोया अगले दिन उठते वैसा ही तो होगा ना हम्म। कोई वो दूध का सुधरा हुआ थोड़ी होगा तो पिछली सृष्टि के अंत में जैसे जैसे लोग थे उनके जैसे जैसे कर्म थे जैसे जैसे उनके संस्कार थे जब प्रलय हुई तो वो यूं के यूं सारे सो गए प्रलय में सो गए अपने कर्म और संस्कार लेके सो गए जब ये सृष्टि बनाई ईश्वर ने तो आरंभ में वही लोग तो जागे थे जो पिछली सृष्टि के अंत में सोए थे तो जैसे जैसे जिसकी पॉकेट में जो था वही का वही लेके जागेगा वो तो वही संस्कार लेके उठेंगे तो पिछली सृष्टि के अंत में अच्छे लोग भी थे खराब भी थे हरे भी थे अनारे भी थे वही इस सृष्टि के आरंभ में थे तो कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे बस वही कभी चल पड़े आगे ईश्वर ने चार वेदों का ज्ञान दिया और समझाया भाई ये करो ये मत करो जो पढ़ेगा उसका लाभ लेगा वो उन्नति करेगा जो नहीं पढ़ेगा लाभ नहीं लेगा तो वो दंड भोगेगा इस तरह से वही क्रम चलता रहता है जो मनुष्य जो पैदा हुई जी उसके पचास टके से ज्यादा तो करना चाहिए शुभ जो मनुष्य बने ना जो मनुष्य हाँ, पचास परसेंट तो कम से कम होना ही चाहिए तो होना ही चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक बात पचास परसेंट तो अच्छे होने चाहिए तभी तो इंसान बनेगा ठीक बात है तो आगे पाठ शुरू करते हैं योग दर्शन दूसरा पाद और सूत्र 21 मंत्र पाठ करेंगे मिल करके बोलिए ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह बीसवा है योग दर्शन दूसरा पाद सूत्र बोलिए तदर्थ तदर्थ एव एव दृश्यस्य दृश्यस्य आत्मा आत्मा भाष्य पढ़ेंगे दृषि रूप दृशि रूपस्य दृशि से पुरुष पुरुषस्य कर्म रूपताम कर्म रूपताम आपन्नम आपन्नम दृश्यम दृश्यम इति इति तदर्थ एव तदर्थ एव दृश्यस्य दृश्यस्य आत्मा आत्मा स्वरूपम स्वरूपम भवति भवति इत्यर्थ इत्यर्थ प्रसंग में दृष्टा और दृश्य की बात चल रही थी ये प्रसंग शुरू हुआ था सोलहवें सूत्र से हेयम दुखम अनागतम यहां से शुरू हुआ था आने वाला दुख छोड़ने योग्य है जो दुख अभी आया नहीं आने वाला है आ सकता है अगले सेकेंड्स में भी आ सकता है अगले मिनटों में घंटों में महीनों में दिनों में वर्षों में कभी भी आ सकता है भविष्य में जो आने वाला दुख है उससे हमको बचना चाहिए उससे बचने की तैयारी करनी चाहिए योजना बनानी चाहिए पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि हम दुख ना भोगें जो भोग लिया वो तो भोग ही लिया उससे तो क्या छूटना जो अब चल रहा है वो भी भोग ही रहे बस आने वाले दुख से बच सकते हैं उसके लिए हमें प्रबंध करना चाहिए ये सूत्र 16 से चला था प्रसंग सत्रहवें सूत्र में इसका कारण बताया गया कि ये दुख क्यों आता है इसका क्या कारण तो कारण बताया दृष्टि योग संयोगो हेय हेतु दुख का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग दृष्टा मतलब जीवात्मा देखने वाला जानने वाला सुनने वाला समझने वाला अनुभव करने वाला भोगने वाला भोक्ता चेतनात्मा ये है दृष्टा दृश्य है ये संसार तो आत्मा और संसार का जब संयोग होता है बस यही दुख का कारण है मतलब आत्मा शरीर के साथ जुड़ गया शरीर में आ गया उसने जन्म धारण कर लिया ये दुख का कारण है लोग कहते हैं शरीर सुख भोगने का साधन है कहते हैं शरीर तो सुख भोगने का साधन और ऋषि लोग कहते हैं ये शरीर ही तो दुख का कारण अगर आप शरीर में आ गए तो फिर दुख से बच नहीं सकते दुख से छूटने का रास्ता है शरीर धारण करना बंद करो आगे जन्म लेना बंद करो तो दुख से छूट पाएंगे नहीं तो नहीं छूट पाएंगे यही दुख का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग प्रासंगिक बातें बताई कि ये दृष्टा कौन है और दृश्य क्या है तो दृश्य के बारे में दो सूत्र बताए 18 और 19 ये जो सारा जगत है संसार ये दृश्य है दृश्य मतलब भोग्य देखने योग्य भोगने योग्य जानने योग्य लाभ लेने योग्य कंज्यूमेबल जिसका हम लाभ उठाएंगे ये है दृश्य और दृष्टा है इसका भोक्ता जो इसका लाभ उठाएगा वो बीसवें सूत्र में दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धोपी पश्य जो दृष्टा है वो चेतन स्वरूप है दृषि मात्रा चेतन स्वरूप है देखने वाला है अनुभव करने वाला है अब कहते हैं इक्कीसवें सूत्र में तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा तो भाष्य की पंक्ति देखिए दृषि रूप से पुरुष से जो दृष्टारूप पुरुष है देखने वाला भोगने वाला भोगता वो है दृष्टारूप जीवात्मा पुरुष उस पुरुष का जीवात्मा का कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यमिति तो जो दृश्य है जगत ये उसकी कर्म रूपता को प्राप्त हुआ हुआ है कर्म रूपता से क्या मतलब व्याकरण शास्त्र में जैसे वाक्य बनाते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से ये कर्म कारक होता है द्वितीय विभक्त अहम भोजनम खादामी अहम कौन है वाक्य में कर्ता भोजनम क्या है कर्म कर्म बस इस कर्म कर्म को यहां पर कहना चाहते हैं तो मैं भोजन को खाता हूं खादामी क्रिया है अहम भोजनम खादामी अहम करता है भोजनम कर्म है और खादामी क्रिया है तो ऐसे ही अहम दृश्यम पश्याम मैं दृश्य को देखता हूं ठीक है तो अहम करता हो गया और दृश्यम कर्म हो गया और पश्यामी क्रिया शब्द हो गया तो जीवात्मा तो है दृष्टा वो तो है कर्ता और किसको देखता है जिसको देखता है वो इसके दृश्य क्रिया का कर्म है इसलिए कहा कर्म रूपताम आपन्नम दर्शन रूपी जो क्रिया है उस क्रिया के कर्म को प्राप्त हुआ हुआ है ये जगत ये जगत संसार दृश्य तो इस तरह से क्या बात बनी दृष्टा है जीवात्मा जगत है दृश्य जीवात्मा इसको देखता है जीवात्मा इस क्रिया में करता है और जगत उसका कर्म है और वो जगत का लाभ लेता रहता है तो जो जिसका लाभ लेता है वो वस्तु उसी के लिए होती है टेलीविजन बनाया गया क्या टेलीविजन का लाभ टेलीविजन स्वयं लेगा वो तो नहीं लेगा कोई और ही इसका लाभ लेगा जो टेलीविजन का लाभ लेगा टेलीविजन उसके लिए बनाया गया जो कार का लाभ लेगा कार उसके लिए बनाई गई जो भोजन का लाभ लेगा भोजन उसके लिए बनाया गया तो जो जगत का लाभ लेगा जगत उसके लिए बनाया गया जगत का लाभ कौन लेगा जीवात्मा जीवात्मा न तो प्रकृति लाभ लेती जगत का न ईश्वर लेता प्रकृति क्यों लाभ नहीं लेती वो जड़ वस्तु है प्रकृति जड़ वस्तु है वो तो जानती ही नहीं सुख दुख हानि लाभ वो तो समझती ही नहीं इसलिए उसको तो कुछ लेना देना नहीं जगत के पदार्थों से उसको कुछ नहीं लेना देना वो समझती ही नहीं ईश्वर चेतन है उसको आवश्यकता नहीं है वो पहले से ही तृप्त है न तृप्त है न कुदश होना ईश्वर आनंद से पूरी तरह से तृप्त है उसको कोई कमी है ही नहीं तो उसको कोई आवश्यकता नहीं इसलिए वो भी जगत से कोई लाभ नहीं लेगा तो न प्रकृति जगत से लाभ लेगी जड़ होने से न ईश्वर जगत से लाभ लेगा सर्वगुण संपन्न होने से आनंद से परिपूर्ण होने से तो तीन में से एक ही बचा जीवात्मा तदर्थ है वो दृश्य से आत्मा उसी के लिए दृश्य का स्वरूप है तो भाष्यकार व्यास जी ने लिखा है तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा आत्मा को खोला है स्वरूपम भवती इत्यर्थ यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप आत्मा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं बहुत सारे शब्दों के अनेक अनेक अर्थ होते हैं तो यहाँ जो आत्मा शब्द है प्राय इसका अर्थ है जीवात्मा ठीक है और अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होते हैं यहाँ आत्मा का अर्थ है स्वरूप दृश्य से आत्मा दृश्य से स्वरूपम जगत का जो स्वरूप है ये जीवात्मा के लिए है तो आत्मा का स्वरूप कैसे हुआ जैसे हम कभी कभी वाक्य बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत खंडनात्मक भाषा बोलता है इसका भाषण खंडनात्मक होता है इस व्यक्ति का मंडनात्मक होता है अब देखिए यहाँ आत्मक शब्द है खंडनात्मक तो यहां भी आत्मा का स्वरूप है खंडनात्मक मतलब खंडन स्वरूप वाला इसमें खंडन अधिक है तो वो खंडनात्मक हो गया जिसके प्रवचन में मंडन अधिक है वो मंडनात्मक हो गया तो इस प्रकार से आत्मा का अर्थ आत्मा शब्द का स्वरूप भी होता है तो यहां दृश्य से आत्मा का मतलब हुआ दृश्य का स्वरूप जगत का स्वरूप जीवात्मा के लिए है तो जीवात्मा यहां आता है शरीर में बैठता है शरीर से संयुक्त होता है और फिर शरीर के माध्यम से इंद्रियों के मन बुद्धि के माध्यम से जगत के अन्य पदार्थों का भोग करता है इस प्रकार से ये भोक्ता बन गया और जगत इसका भोग्य बन गया बस ये भाष्य पूरा हो गया और सूत्रकार सुनिए तदर्थ एवं उसी के लिए ही उसके लिए किसके लिए आत्मा, के लिए जीवात्मा के लिए दृष्टा के लिए पिछले सूत्र में था दृष्टा तो तदर्थ उस दृष्टा के लिए ही जीवात्मा के लिए ही दृश्य से संसार का जगत का आत्मा स्वरूप स्वरूप है जगत जीवात्मा के लिए बनाया गया अगले सूत्र की भूमिका पढ़ेंगे तत्स्वरूपम तो तत्स्वरूपम तो पर रूपेण पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम प्रतिलब्धात्मकम भोग अपवर्गार्थतायाम भोग अपवर्गतायाम कृताया कृतायाम पुरुषेण पुरुषेण न दृश्यते न दृश्यते भाष्यकार कहते हैं व्यास जी महाराज तत्स्वरूपम तू इस जगत का जो स्वरूप है पर रूपेण जो पर स्वरूप वाला है पर रूपी पर माने दूसरा जगत से भिन्न जगत से भिन्न जीवात्मा ठीक है तो पर का अर्थ हुआ जीवात्मा तत्स्वरूपम तू पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम ये प्रतिलब्धात्मक है यानी जानने योग्य है जीवात्मा के द्वारा जगत जानने योग्य है भोगने योग्य है लाभ लेने योग्य है ठीक है अब ये जो जगत है भोग अपवर्ग अर्थतायाम कृतायाम जीवात्मा के दो प्रयोजन बताए थे अभी अठारहवें सूत्र में भोग और अपवर्ग तो कहते हैं भोग अपवर्ग अर्थतायाम ये दो प्रयोजन इसके भोग भी और अपवर्ग भी दोनों के दोनों प्रयोजन कृतायाम कृत हो जाने पर सिद्ध हो जाने पर पुरुषण न दृश्यते अब ये जगत फिर पुरुष को नहीं दिखता मतलब उसके लिए उपयोगी नहीं रहता यूजलेस आपको भोजन खाना था भोजन खा लिया पेट भर गया अब भूख नहीं है तो अब कितना भी भोजन रखा रहे आपके लिए बेकार है आपका खा पी के पेट भर गया तो अब वो भोजन आपके लिए अनुपयोगी है तो ये बात कह रहे हैं पुरुष है न दृश्य थे फिर पुरुष को ये नहीं दिखता अर्थात फिर पुरुष इसका लाभ नहीं लेता ले लिया उसने दो काम करने थे दोनों सिद्ध हो गए भोग भी हो गया और अपवर्ग भी हो गया भोग का मतलब पिछले कर्मों का फल भोगना भोग का मतलब मजा लेना नहीं हाँ जैसे लोग मजा ले रहे हैं कल थर्टी फर्स्ट था ना खूब रात को पार्टियां चली होंगी देर तक होटलों में डांस चले होंगे ये सब वो थर्टी फर्स्ट मना रहे हैं न्यू ईयर मना रहे हैं तो लोग इस पार्टी का मजा ले रहे हैं खाना पीना डांस करना भोग कार्य नहीं है ये तो उसका दुरुपयोग ईश्वर ने जगत इसलिए नहीं बनाया था जगत इसलिए बनाया था अपने पिछले कर्मों का फल भोग लो ये था भोग का मतलब और आगे अच्छे नए नए बढ़िया कर्म करो निष्काम कर्म करो और मोक्ष में जाओ ये दो प्रयोजन से जगत बनाया था तो जिस आत्मा ने पिछले कर्मों का फल भी भोग लिया और आगे नए अच्छे कर्म करके मोक्ष की तैयारी कर ली मोक्ष की योग्यता बना ली उसके दोनों प्रयोजन सिद्ध हो गए तो ऐसा हो जाने पर फिर जगत उसके लिए व्यर्थ है अनुपयोगी है वो जगत को फिर नहीं देखता इसका भोग नहीं करता आगे पढ़िए स्वरूप हानात स्वरूप हानात अस्य अस्य नाश नाश प्राप्त प्राप्त तो जब जीवात्मा का प्रयोजन दोनों सिद्ध हो गए पिछले कर्मों का फल भी भोग लिया और मोक्ष की योग्यता भी बन गई अविद्यादि क्लेश भी नष्ट हो गए तो अब तो जगत उसके काम का नहीं है जब जगत उसके काम का नहीं है तो ये नष्ट हो जाना चाहिए ठीक है इस मकान में रह लिए और मकान सौ डेढ़ सौ साल पुराना हो गया अब वो चल नहीं सकता गिर सकता है कभी भी छत गिर सकती है आदमी मर जाएंगे डब के तो उसको तोड़ फोड़ देना चाहिए कोई काम का तो है नहीं उसमें कोई रहेगा नहीं अब तो इसी तरह से जब जगत से उसने योग्यता प्राप्त कर ली मोक्ष की और पिछला कर्मफल भी भोग लिया तो जगत को नष्ट कर देना चाहिए परंतु कहते हैं आगे पढ़िए न तो न तो विनश्यति विनश्यति फिर भी जगत नष्ट नहीं होता एक आत्मा की योग्यता बन गई मोक्ष की वो तो मोक्ष में जाएगा तो अब जगत उसके लिए उपयोगी नहीं है तो जगत का नाश कर देना चाहिए परंतु कहते हैं नहीं नहीं फिर भी जगत का नाश नहीं करेंगे न तो विनश्यति कस्मात कस्मात क्यों नहीं नष्ट करेंगे जगत को इसलिए अगला सूत्र है बाईसवां बोलिए कृतार्थम प्रति कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम अपि अनष्टम अनष्टम तद अन्य तद अन्य साधारणत्वात् साधारणत्वात् भाष्यम कृतार्थम कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति एकम पुरुषम प्रति दृश्यम दृश्यम नष्टम नष्टम नष्टमपि नाशम प्राप्तम अपि नाशम प्राप्तम अपि अनष्टम अनष्टम तद अन्य तद अन्य पुरुष पुरुष साधारणत्वा साधारणत्वा कहते हैं कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति एक जीवात्मा ने अपने दोनों प्रयोजन सिद्ध कर लिए कृतार्थ हो गया कृत अर्थ जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया अर्थ माने प्रयोजन कृत माने कर लिया पूरा कर लिया जिस एक व्यक्ति ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया वो दोनों प्रयोजन कर्मों का फल भोग लेना और मोक्ष की योग्यता बना लेना तो उसके प्रति तो दृश्यम नष्टम अभी उसके लिए तो ठीक है जगत बेकार है नष्टम अपी को आगे खोला नाशम प्राप्तम अपी उसके लिए तो नाश को प्राप्त हो गया मतलब अनुपयोगी हो गया बेकार हो गया यूजलेस हो गया फिर भी अनष्टम फिर भी उसको नष्ट नहीं करेंगे जगत को बचा रहेगा तोड़ेंगे नहीं सारे जगत को क्यों नहीं तोड़ेंगे तद अन्य पुरुष साधारणत्वार्थ बाकी अभी करोड़ों व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए तो उपयोगी है ना हम्म। एक को समझ में आ गया संसार में दुख है बाकी वो थोड़ी आया बाकी तो कह रहे हैं संसार में सुख है तभी तो पार्टी मनाते हैं होटल में जाते हैं डांस करते हैं खाते हैं पीते हैं सारे बैंड बाजे बजाते हैं शादी करते हैं ये करते हैं वो करते हैं तभी तो वो कर रहे हैं ना उनके लिए तो अभी काम है तो। मेरी यात्रा पूरी हो गई ट्रेन में तो इसका मतलब ये थोड़ी ट्रेन को तोड़ डालो <laughs> मेरी यात्रा पूरी हो गई और तो अभी बैठे ना यात्री उनको तो यात्रा करनी तो इसलिए मेरी यात्रा पूरी होगी मैं ट्रेन छोड़ दूंगा बाकी लोग बैठेंगे उसमें तो एकांत को जिसको तत्व ज्ञान हो गया वैराग्य हो गया मोक्ष हो गया वो तो चला जाएगा मोक्ष में बाकी लोग अभी जगत से लाभ उठाएंगे उनके लिए अभी काम का है तो जैसे एकाध व्यक्ति को समझ में आया ये संसार दुखदायक है ऐसे बाकियों को अभी समझ में आना शेष है वो भी संसार में खाएंगे पिएंगे डांस करेंगे पार्टियों में जाएंगे पैसे कमाएंगे और रोगी होंगे फिर दुखी उखी होंगे फिर धोखे खाएंगे अन्याय सहन करेंगे सारे अनुभव करेंगे यहां संसार में और कर करके एक दिन उनको भी समझ में आ जाएगा जैसे इसको समझ में आया ऐसे औरों को भी समझ में आएगा दुनिया तो वही वही सूरज है सबके लिए वही चांद है वही धरती है वही खाना पीना है अगर एक व्यक्ति को यहां तृप्ति नहीं हुई भोग्य पदार्थों से तो बाकियों को भी नहीं होने वाले उसको यहां पर दुख दिखाई दिया तो औरों को भी दिखेगा वस्तु तो वही है तो एक को दिख गया बाकियों को दिखा नहीं इसलिए बाकियों को अभी काम बाकी है वो इसको खाएंगे पियेंगे डांस करेंगे सारे काम करेंगे और जब उनको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ दुख भरे वो भी चल देंगे फिर मोक्ष में जी मतलब जिसको अपने को मालूम ऐसा पड़ सकता है कि उसकी तैयारी हो गई है हाँ उसको खुद को पता चलता है खुद को खुद को पता पूरा पता चलता है बहुत बढ़िया पता चलता है हाँ। कि मेरी मोक्ष की योग्यता कंप्लीट हो गई <coughs> उसको ये पता चल जाता है मेरा अगला जन्म नहीं होगा अब मैं मोक्ष में जाऊंगा ये मेरा आखिरी शरीर है उसको पता चलता है बिल्कुल अभी आएगा पाठ में आएगा थोड़ी देर के बाद सत्ताईसवें सूत्र में ये बात आएगी और हर व्यक्ति को पता चलता है अपना स्तर कैसा चल रहा है घट रहा है बढ़ रहा है सब पता चलता है कोई ध्यान देगा तो पता चलेगा नहीं ध्यान देगा तो नहीं पता चलेगा आप जब धन कमाते हैं खर्चा करते हैं तो पता नहीं चलता है कितना कमा रहे हैं कितना खर्च हो रहा है क्या बैलेंस बचा है पता चलता है तो ऐसे ही संसार में राग बढ़ रहा है द्वेष बढ़ रहा है या कम हो रहा है पता नहीं चलता क्या खूब पता चलता है जो ध्यान देता है उसको पता चलता है तो ध्यान देते रहेंगे परीक्षण करते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि संसार में दुख है इसने भी धोखा दिया उसने भी धोखा दिया उसने झूठ बोला उसने मूर्ख बनाया इसने लूट लिया उसने पैसे खा गया तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है यहाँ संसार में दुख भरे पड़े तो ऐसे एक एक करको सब सबको समझ में आ जाएगा एक एक करके तो जैसे जैसे समझ में आता जाएगा उसका भोग वर्ग सिद्ध हो जाएगा वो अपना मोक्ष में चला जाएगा बाकियों को अभी काम बचा रहेगा वो अपना करते रहेंगे खाते रहेंगे पीते रहेंगे इस तरह से तो अन्यों के लिए काम का है अभी जगत कुशलम पुरुषम प्रति कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अभी नाशम प्राप्तम अभी अकुशलान अकुशलान पुरुषान पुरुषान प्रति प्रति न कृतार्थम न कृतार्थम इति इति तेषाम तेषाम दृशे दृशे कर्म विषयताम कर्म विषयताम आपन्नम आपन्नम लभत एव लभत एव पररूपेण पररूपेण आत्मरूपम आत्मरूपम इति इति कुशलम पुरुषम प्रति कुशल पुरुष उसका नाम है जिसकी मोक्ष की योग्यता बन चुकी जिसके अविद्यादि क्लेश पूरे नष्ट हो गए सब पांच क्लेश बीज हो गए वो है कुशल उसका नाम है एक्सपर्ट असली एक्सपर्ट तो वो है लोग आजकल दूसरे को धोखा देने में एक्सपर्ट समझते हैं आजकल एक्सपर्ट की क्या परिभाषा है जो जितना उल्लू बनाए दूसरे को मूर्ख बनाए धोखा दे वो उतना बुद्धिमान <laughs> ये बुद्धिमान की परिभाषा है हकीकत ये कि वो अपने को धोखा दे यस सच्चाई तो ये है कि वो खुद को धोखा दे रहा है अपने पाप कर्म जमा कर रहा है उसको दंड भोगना पड़ेगा हम्म। तो असली एक्सपर्ट असली कुशल पुरुष कौन है जिसने संसार को समझ लिया ईश्वर को समझ लिया अपने आत्मा को समझ लिया और उसने मोक्ष की योग्यता बना ली जिसके अविद्या आदि क्लेश समाप्त हो गए दग्वीज हो गए वो है कुशल तो कुशलम पुरुषम प्रति उस पुरुष के प्रति उसके लिए नाशम प्राप्तम अपी ये जगत नष्ट हुआ हुआ भी अर्थात यूजलेस अनुपयोगी हुआ हुआ भी अकुशलान पुरुषान प्रति जो बाकी संसार के लोग हैं जो कुशल नहीं बने अभी जिनको अभी संसार समझ में नहीं आया यहाँ के दुख समझ में नहीं आए और अभी उनको वैराग्य नहीं हुआ अभी ईश्वर और मोक्ष उनको समझ में नहीं आया जो संसार में अभी भी सुख समझ रहे हैं और सुख के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे अकुशल पुरुषों के प्रति न कृतार्थमिति वो कृतार्थ हुए नहीं उनका प्रयोजन अभी सिद्ध हुआ नहीं इति इसलिए तेषाम दृशे कर्म विषयताम आपन्नम जगत लभता हो तो उनके उन दृष्टा दृष्टाओं के जो बाकी जीवात्माएं हैं उन जीवात्माओं के कर्म विषयता को प्राप्त हुआ हुआ ये जगत वो तो इसको खाएंगे पिएंगे भोगेंगे तो ये उनका कर्म है भोगने का भोग्य रूप है ये इस प्रकार से उनको लभता एवं उनको प्राप्त होता ही है पर रूपेण वो पर रूपी जीवात्मा के द्वारा आत्मरूपम जगत का स्वरूप तो बाकी लोग इस जगत का लाभ उठाते रहेंगे इसका लाभ सिर्फ इतना ही है कि इसमें दुख समझ लो बस जगत का लाभ केवल इतना ही है कि आपने समझ लिया यहाँ पर एक्सपीरियंस कर करके अनुभव कर करके कि इसमें दुख है अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस जगत का इतना ही लाभ है और कुछ नहीं है रोटी आपके पेट में चली जाएगी आत्मा में नहीं जाएगी घी दूध मक्खन मलाई मिठाई सब पेट में जाएगा शरीर में जाएगा आत्मा में नहीं जाएगा तो आपने जगत से तो लाभ तो कुछ भी नहीं उठाया अगर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भौतिक दृष्टि से आपने कोई 200-400 परमाणु आत्मा में मिक्स कर रही हो आत्मा में जोड़ लिया हूं ऐड कर लिया हूं तब तो ठीक है अभी हमने लाभ उठा लिया तो परमाणु तो एक भी नहीं ऐड होने वाला आत्मा के साथ जोड़ता नहीं वो तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा तो भौतिक रूप से तो कोई लाभ नहीं है लाभ केवल ज्ञानात्मक है सिर्फ इतना ही लाभ है कि इसको हम समझ लें इसमें दुख भरा और ये जितना जल्दी समझ में आएगा उतना दुख से जल्दी छूट जाएंगे और जितनी देर में आएगा उतना देर लगेगी पचास जन्म में समझ आ गया तो पचास जन्म में दुख छूट जाएगा मोक्ष हो जाएगा अगर इसी बात को समझने में 2000 जन्म लगाए तो इतना लंबा दुख और भोगना पड़ेगा तो ये तो अपनी अपनी बुद्धिमत्ता योग्यता पुरुषार्थ की चतुराई की बात है कौन कितनी जल्दी समझता है इस जगत को तो जगत तो उपलब्ध है लो भाई खाओ पियो देखो तुम मेरा परीक्षण कर लो वो तो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है अब हमारी बुद्धिमत्ता है कि हम कैसे क्या लाभ उठाते हैं इसका तो इस प्रकार से जीवात्मा के ये कर्म विषयता को प्राप्त हुआ हुआ जगत अपने स्वरूप को दिखाता रहता है और कहता है लो मेरा लाभ ले लो जी जो इस जगत में दुख है हम्म। दुख है एक जानना एक स्थिति है हम्म। और जो मुमुक्ष है हम्म। वो क्या दुखी होता है उस दुख से या क्या उसकी स्थिति क्या रहती है बहुत अच्छा प्रश्न तो मुमुक्षु होता है मुमुक्षु तो वैसे सारे ही है सभी लोग दुख से छूटना चाहते हैं ठीक है पर जो थोड़ा आगे बढ़ रहा है कुछ अनुभव कर चुका है कुछ बुद्धि चल रही है कुछ समझ रहा है कि यहाँ दुख है यहाँ दुख है पैसा कमाओ झंझट है मकान बनाओ गाड़ी खरीदो बच्चे पालो व्यापार करो वहां जाओ पार्टी में जाओ इतना झंझट करो उसको ये समझ में आ रहा है तो उसको ये दुख जब समझ में आ रहा है कि इसमें झंझट है परेशानी है टेंशन है चिंता है तनाव है तो वो क्या करता है इस दुख से दुखी नहीं होता दुख से बचाव करता है जैसे आप सड़क पर खड़े हैं और सामने से ट्रक आ रहा है और आप समझ रहे हैं अगर मैं यहां खड़ा रहा तो ये ठोक देगा तो आप समझ रहे हैं ना मैं खड़ा रहा तो मुझे दुख होगा तब आप क्या करते हैं भाग जाते हैं वहां से आप दुखी नहीं हुए आप सावधान हो गए और उस दुख से बच गए साइड में हट गए तो उस आने वाले दुख से बच गए तो मुमुक्षु यही करता है वो कहता है अगर मैं जॉब करता हूं व्यापार करता हूँ पैसे कमाता हूँ मकान बनाता हूँ शादी करता हूँ बच्चे पैदा करता हूँ तो इतना सारा काम बढ़ जाएगा मेरा तो इससे बच लो ना तो वो बच जाता है न मकान बनाता है न कार खरीदता है न बंगले बनाता है न नौकरी करता है न व्यापार करता है वो अपनी जान छुड़ा लेता है बच जाता है इधर ऐसे बचाव करता है दुखी नहीं होता दुख को समझता है और उससे बच जाता है ऐसी स्थिति होती अब जब तक वो इस चीज को याद रखता है ये स्तर उसका हमेशा नहीं टिका रहता ज्ञान का स्तर नीचे उठता गिरता रहता है जो अभी आपका स्तर है कि संसार में दुख है इस समय आपका स्तर है क्लास में अभी क्लास पूरी हो जाएगी रसोई में जाएंगे खाना बनाएंगे जब खाएंगे तो दिमाग उलट उल्टा हो जाएगा तब दिमाग में ऐसा आएगा संसार में सुख है पार्टी में जाएंगे वहां बिल्कुल विचार उल्टा हो जाएगा अच्छे अच्छे लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए बढ़िया बढ़िया चमकदार नहा धो के प्रेस किए हुए धुले हुए कपड़े और परफ्यूम मार के आएंगे और अच्छा अच्छा डेकोरेशन होगा बढ़िया बढ़िया खाने की टेबल सजी हुई है देखा फिर दिमाग घूम जाएगा तो वो जो ज्ञान है वो डाउन हो जाएगा उतर जाएगा और दूसरा मिथ्या ज्ञान फिर हावी हो जाएगा तो उसको क्या करना होता है वो उस परिस्थिति में भी दुख देखता है कि ये पार्टी है फैशन है डांस है नाच गाना है आखिर इसका परिणाम क्या निकलेगा थोड़ी देर का सुख है अभी एक घंटा दो घंटा नाचेंगे फिर थक जाएंगे बेचारे रात को सो जाएंगे ऐसे तो ये तो बस थोड़ी देर का सुख है और फिर परिणाम बहुत खराब है इसका राग द्वेष बढ़ता जाएगा फिर संस्कार ऐसे बनेंगे फिर बार बार पार्टियों का आयोजन करेंगे फिर आज तो हो गए लोग इकट्ठे फिर अगले महीने होंगे नहीं कोई दिल्ली जाएगा कोई कलकत्ते जाएगा कोई व्यापार में जाएगा उसकी बड़ी इच्छा है कि अगले महीने फिर पार्टी होनी चाहिए और लोग इकट्ठे होंगे नहीं फिर वो दुखी होता रहेगा तो तत्वज्ञानी व्यक्ति को ये सब अगले महीने क्या होगा दूसरे तीसरे महीने क्या होगा पांचवें महीने क्या होगा एक वर्ष में क्या क्या होगा उसको पहले ही हम दिमाग में सारा कुछ दिखता है तो उसको पहले ही दिखता है कि ये सब नहीं होने वाला जो मैं चाहता हूं और जब नहीं होगा तो फिर मुझे दुख होगा तो वो दुख उसको पहले से ही दिखता है इसलिए कहता छोड़ पार्टी में जाना ही नहीं ये काम छेड़ छेड़ नहीं ये शुरू ही नहीं कर देख लिया बहुत देख लिया पिछले जन्मों में यही तो किया और क्या किया पिछले जन्मों में स्कूल गए पढ़ाइया की डिग्रियां ली पैसे कमाए खाया पिया नौकरियां की बच्चे पैदा किए बूढ़े होकर मर गए फिर क्या हुआ कुछ भी नहीं रिजल्ट तो वही का वही इच्छाएं तो खत्म हुई नहीं आज भी वैसी इच्छाएं बनी हुई और जितना हम इच्छाओं को पूरा करते जाते हैं और इच्छाएं बढ़ती जाती हाँ या ना हाँ। बढ़ती बढ़ती बस यही समझना कि जितना जितना हम इच्छाओं को पूरा करते जाते हैं उतना उतना इच्छाएं बढ़ती जाती हैं क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं नहीं नहीं हो सकती तो इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं <coughs> जो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी वो सुख देंगी सुख देंगे बस ये समझना जिसको समझ में आ जाता है वो इच्छाओं को कम करना शुरू कर देता है कहता है कम करो जितना हो सके कम करो कम से कम इच्छा रखेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे इच्छाओं को बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ेगा ये उसको समझ में आ जाता तो फिर वो सोचता है कि कम से कम इच्छा कितनी बस जीने तक जीना जरूरी है तो जीने तक की जो इच्छाएं बस उतनी ही रखता है रोटी मिल जाए कोई ठहरने की सोने की जगह मिल जाए कुछ कपड़ा पहनने को मिल जाए कोई किराया भाड़ा यात्रा के लिए मिल जाए बस बहुत हो वो इतनी कम इच्छाएं रखता है कि बस जीवन ठीक ठाक चलता रहे और कुछ नहीं चाहिए न धन चाहिए ना सम्मान चाहिए ना पार्टी चाहिए ना कोई टेलीविजन में जाना है ना अखबार में फोटो छपानी है ना कोई देश विदेश की यात्राएं करनी कुछ नहीं करना सिर्फ जीवित रहना है और जीवित क्यों रहना है इसलिए कि मैं इन शास्त्रों को पढ़ सकूं विद्या को प्राप्त कर सकूं इसलिए जीना है स्वस्थ रहना शरीर स्वस्थ रहे शरीर स्वस्थ रहे ताकि मैं विद्या पढ़ सकूं समाज की सेवा कर सकूं निष्काम भाव से कर्म करूं और फिर ध्यान उपासना समाधि लगा सकूं बस इतना उद्देश्य है इतना करने से मेरा मोक्ष हो जाएगा तो वो इतनी ही इच्छाएं रखता है इसलिए वो दुनिया से ज्यादा सुखी होता है अब दूसरे लोग ये सब बातें देख नहीं पा रहे उनको पैसे कमाने में बंगला बनाने में कार खरीदने में आदि आदि व्यापार में संपत्ति जमा करने में सुख दिख रहा है फिर इसमें बहाने और कई आ जाते हैं कई बहाने भी आते हैं जैसे कई लोग कहते हैं साहब पैसे कमाने चाहिए वेद में लिखा है पैसे कमाओ शतहस्त समाहर मैंने कहा लिखा है फिर आगे भी तो लिखा है वो आगे वाला तो आप पढ़ते ही नहीं आगे क्या लिखा है सहस्त्र हस्त संकीर्ण सौ हाथ से कमाओ हजार हाथ तक बांटो ये भी तो लिखा है वो तो आप पढ़ते नहीं आप आधा ही पढ़ते हैं बस कमाए जाओ कमाए जाओ तो बांटते तो है नहीं और फिर एक व्यक्ति कहता चलो इसलिए कमा रहे हैं आगे बांट देंगे इसलिए कमाना चाहिए वेद में लिखा है मैंने कहा ठीक है वेद में तो लिखा है आपने अभी तो पढ़ लिया कि शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संख्य सौ हाथ से कमाओ हजार हाथ तक बांटो ये विचार आपका तब तक बना रहेगा जब तक पैसा हाथ में नहीं आएगा तब तक तो है हजार हाथ तक बांटो और जैसे ही पैसा हाथ में आएगा आपका दिमाग घूम जाएगा वो पैसा जो है बुद्धि को घुमा देगा फिर कहेगा क्यों बांटो कोई मुखद का पैसा थोड़ी इतनी मेहनत करके कमाए ऐसे थोड़ी बांट देंगे हमने कमाया हमारा पैसा हम क्यों बांट रहे देंगे तो दो करोड़ कमाएंगे दस बीस हजार पचास हजार दे देंगे बस ऐसे लोग यूं ना कहें कि इतना कंजूस है कुछ भी नहीं देता तो लोग ऐसा ना कहें कि कंजूस है इसलिए थोड़ा सा बदनामी से बचने के लिए थोड़ा सा दस बीस पचास हजार दे देंगे तो ऐसे बहाने आते हैं लोगों के कि दान देने के लिए हम कमा रहे हैं ये बहाना है और लोग दान देते नहीं है सिर्फ कमा कमा के जमा कर लेते तो व्यक्ति किसी बहाने से फंस जाता है कोई किसी बहाने से फंस जाता है वो पैसे में फंसा रहता है भौतिक संपत्ति में फंसा रहता है उसको दुख नहीं दिखते तो तत्व ज्ञानी क्या करता है वो इसमें दुख देखता है वो कहता है मैं पैसा कमा करके बांटू उसमें भी पुण्य मिलता है एक पक्ष तो ये पैसा कमाओ और बांटो दान दो उसका पुण्य कमाओ वो देखता है विद्या प्राप्त करके विद्या बांटो तो उसमें भी तो पुण्य मिलता है अब पैसा दान करें और विद्या दान करें दोनों में से अधिक किसमें पुण्य मिलता है विद्या दान बस तो ये उसको समझ में नहीं आता उसको पैसा कमाने में और दान देने में सुख दिखता है उसमें पुण्य अधिक दिखता है वो वैश्य बन जाता है जिसको विद्या प्राप्ति में और विद्या दान में अधिक सुख दिखता है वो ब्राह्मण बन जाता है तो मोक्ष का रास्ता तो ब्राह्मण बनने से खुलेगा तो वो कल समझ में आएगा प्रयोग करने से आएगा समझ में तो जब व्यक्ति पैसे कमा कमा के खा खा के भोग भोग के थक जाएगा और अनेक दुखों से ग्रस्त हो जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि पैसा छोड़ो विद्या प्राप्त करो उससे आदमी ज्यादा सुखी रहता है तो ऐसे ऐसे फिर उन्नति होगी ठीक है हाँ धन्यवाद जी तो ये बात चल रही थी जीवात्मा को जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए जगत अपना स्वरूप दिखाता रहेगा और जीवात्मा भोग भोग के परिणाम निकालता रहेगा तो जो इस तरह से परीक्षण दृष्टि से खाएगा पिएगा भोगेगा पैसे कमाएगा उसको तो जल्दी से समझ में आ जाएगा और जो परीक्षण की दृष्टि नहीं रखता है बस अंधाधुंध खाए जाओ कमाए जाओ दुनिया चल रही है हम भी चल रहे हैं दुनिया एमटेक कर रही है हम भी कर रहे हैं दुनिया सीए कर रही है हम भी कर रहे हैं दुनिया शादी कर रही है हम भी कर रहे हैं दुनिया जो कर रही है हम भी कर रहे हैं अंधाधुंध दुनिया भोग रही है हम भी भोग रहे हैं उसको नहीं आएगा समझ में उसको पचास जन्म तक भी नहीं आएगा उसका वो मोक्ष उसके दिमाग में ही नहीं है उसके दिमाग में तो ये है बस जो दुनिया कर रही है हम भी कर रहे उसको नहीं आएगा तो जब तक नहीं आएगा तब तक भी जगत उसको अवसर देता रहेगा और खाओ और भोगो एक जन्म दो जन्म एक करोड़ जन्म बीस करोड़ जन्म जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम तुमको अवसर देंगे ईश्वर बहुत दयालु <laughs> वो तब तक चांस देता ही रहेगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा एक सृष्टि खत्म हो जाएगी प्रलय हो जाएगी फिर नहीं बनाएगा सृष्टि कहेगा अभी भी तो उनको समझ में नहीं आया और भोग और भोग और दंड भोग जब दंड भोग भोग के दुखी हो हो के अकल आ जाए फिर मेरे पास आना फिर तुमको मैं मोक्ष में भेज दूंगा तो इस तरह से बार बार ईश्वर सृष्टि बनाता रहता है आगे पढ़ते हैं अतश्च एक प्रश्न हाँ प्रश्न बोलिए आत्मा में तो जी जी एक यंत्र है जो शरीर के साथ है जी आत्मा से वो तो अलग हो जाएगा जी फिर उसमें अकल कहाँ से आएगी आत्मा में बिना यंत्र के आत्मा में ना हाँ आत्मा में निर्णय लेने की अपनी मूल क्षमता भी है बुद्धि तो एक्सटर्नल इक्विपमेंट है वो तो बाहर से उसने जोड़ रखी जैसे हम चश्मा लगा लेते हैं ना आंख के ऊपर एक चश्मा लगा लेते हैं तो चश्मा तो शरीर का अंग नहीं है बाहर से जोड़ लिया और अपने शरीर का अंग है आंख इसी तरह से जीवात्मा में जो बुद्धि इस समय जुड़ी हुई है वो भी चश्मे की तरह बाहर से जोड़ है अगर ये अलग कर देंगे तो उसके अपने अंदर ओरिजिनल क्षमता है निर्णय लेने की तो वो उसके पास रहेगी तब भी रहेगी और वो लेकर के मोक्ष में चला जाएगा मन बुद्धि इंद्रिया शरीर जो भी अभी हमने जोड़ रखा है प्रकृति से ये सारे उपकरण जोड़ रखे हैं जब मोक्ष में जाएंगे तब इन सबको छोड़ देंगे और ये सारी क्षमताएं उसमें जीवात्मा में मूल स्वरूप में है देखने की भी है सुनने की भी है सूंघने की भी है चखने की भी है बोलने की भी है सारी क्षमताएं हैं ओरिजिनल वो 24 शक्तियां हैं सारी 24 सत्यार्थ प्रकाश के नौवे समोदास में लिखी है वो जीवात्मा की अपनी तो आज जीवात्मा के पास वो आज भी है पर वो इतनी कम है इतनी थोड़ी है कि जब तक ये ऊपर के उपकरण नहीं जोड़ेंगे ये आंख नहीं जोड़ेंगे तब तक बेचारा देख नहीं पाएगा इसलिए उसको जरूरत पड़ती है आंख भी जोड़ता है कान भी जोड़ता है मन बुद्धि इंद्रिया सारी चीजें जोड़ लेता है ईश्वर जोड़ के देता है उसको स्वयं उसके बस का नहीं तो ईश्वर सारी चीजें बनाकर उसको दे देता है और वो इनका लाभ लेता रहता है और जब सारे डिसीजन ले लेता है कि ये संसार ही है छोड़ो तब वो इसको छोड़ देता है और ईश्वर उसका मोक्ष कर देता है तब मोक्ष में उसकी अपनी ओरिजिनल शक्ति तो है वो चलती है साथ तब वहां वो अपनी ओरिजिनल शक्ति वहां भी कम पड़ती है जैसे आज कम पड़ती है वहां भी कम पड़ती है वो तो उतनी ही है तो उसको कोई ना कोई बाह्य सहायता जरूर चाहिए उसके बिना उसका काम नहीं चलता तो यहां बंधन की स्थिति में वो प्रकृति के उपकरण इस्तेमाल करता है मोक्ष में ईश्वर के उपकरण इस्तेमाल करता है मीन्स चेंज हो जाते हैं बस इतना ही होता है हाँ साधन बदल जाते हैं वहां ईश्वर अपनी शक्ति दे देता है देखने की तो यहां हमने प्रकृति की आंख जोड़ ली वहां ईश्वर अपनी आंख जोड़ देगा लो भाई मेरी आंख से तुम भी देख लो जैसे मैं देख रहा हूं तुम भी देख लो अर्थात ईश्वर की जो देखने की शक्ति है वो अपनी शक्ति जीवात्मा को जोड़ देगा और उससे जीवात्मा देख लेगा सुनने की शक्ति उसकी अपनी ओरिजिनल है ऊपर से ईश्वर अपनी और जोड़ देगा शक्ति उससे वो सुन भी लेगा घूम भी लेगा बात भी कर लेगा सुन भी लेगा टेस्ट भी ले लेगा सारे काम कर लेगा एक व्यक्ति ने कहा मोक्ष में भी टेस्ट लेना पड़ता है क्या मैंने कहा हाँ। तो फिर यहां से जाने की जरूरत ही क्या थी <laughs> यही टेस्ट ले ही रहे थे <laughs> फिर वहां जाने की क्या जरूरत थी अगर उसकी अभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई खाने पीने घूमने चखने की तो फिर यही ठीक था ना तो इसका उत्तर ऋषि लोग ऐसा बताते हैं जब तक शरीरधारी रहेंगे हम और इन प्राकृतिक साधनों से इन वस्तुओं का टेस्ट लेंगे खाएंगे पिएंगे सुख भोगेंगे तो साथ साथ दुख भी भोगना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रकृति है ना ये सत्व रज और तम तीन का सम्मिश्रण है इसमें केवल सत्व नहीं है रज और तम भी साथ है और हमने जो शरीर मन इंद्रिया बुद्धि की सहायता ली इन सारे साधनों में सत्व रज तम तीनों मिक्सड है इसलिए रजोगुण भी अपना प्रभाव दिखाएगा तमोगुण भी दिखाएगा तो हमें यहां सुख के साथ साथ दुख भी भोगने पड़ेंगे अब इसकी तुलना करते हैं मोक्ष के साथ यदि मोक्ष में चले गए तो मोक्ष में क्या होगा ये प्रकृति के सारे साधन छूट जाएंगे मन इंद्रिया बुद्धि शरीर सब छूट जाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण का जो आक्रमण हो रहा है वो बंद हो जाएगा तो वहां दुख नहीं आएगा यहां दुख आएगा वहां दुख नहीं आएगा तो वहां क्या होगा ईश्वर का आनंद लेंगे बिल्कुल शुद्ध आनंद केवल सुख है जिसमें दुख बिल्कुल नहीं है हम्म स्वर्य से च केवलम तस्मय ज्येष्ठाय ब्रह्मणे न जिसके स्वरूप केवल सुखी सुख है स्वर स्वर्य से च केवलम केवल सुखी है ईश्वर के स्वरूप में दुख बिल्कुल नहीं है तो वहां केवल सुख भोगेंगे मोक्ष में और फिर रही बात कि फिर टेस्ट लेने की क्या जरूरत है जब ईश्वर का सुख ले ही रहे तो फिर प्रकृति के गुलाब जामुन का टेस्ट लेने की क्या आवश्यकता बचगी तो इसका उत्तर है कि वहां सुख नहीं लेंगे गुलाब जामुन का उसकी जानकारी करेंगे सुख तो ईश्वर का लेंगे देखेंगे दुनिया को सुख ईश्वर का लेंगे दुनिया की जानकारी करेंगे कि समुद्र में मछलियां कैसी कैसी होती हैं कैसे कैसे कलर होते हैं कैसे कैसे डिजाइन होते हैं और कितने प्रकार की मछलियां होती हैं कई तो लाइट मारती हैं ऐसी भी समुद्र में देखते हैं ना डिस्कवरी चैनल पे ऐसी लाइट फेंकती है मछलियां ऐसी ऐसी होती फिर बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं फिर शार्क होती है डॉल्फिन हाँ। होती है फिर व्हेल मछली होती है बड़ी बड़ी मछलियां होती है तरह तरह की तो वो जानने की इच्छा तो बनी रहती है क्योंकि मोक्ष में जीवात्मा अल्पज्ञ होता है सर्वज्ञ नहीं होता इसलिए उसकी जानने की इच्छा तो बनी रहती है चलो देखते हैं क्या क्या है दुनिया में घूम के आएंगे सैर सपाटा करके आएंगे इसलिए भगवान ने घूमने की छूट दे रखी है जाओ घूमो देखते रहो और चखना हो तो चख लो चौधरी स्वीट देसी घी की मिठाई है <laughs> उसका टेस्ट लेता हूँ जाओ घुस जाओ मिठाई में और उसका टेस्ट ले लो पता लग जाएगा लड्डू में क्या फर्क है बालूशाही में क्या फर्क है और गुलाब जामुन में क्या फर्क है टेस्ट में रसगुल्ले में क्या अंतर है फिर ड्राई फ्रूट्स में घुस गए तो बादाम का टेस्ट कैसा है काजू का कैसा है आदि आदि जानकारी के लिए जाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है सुख नहीं रहेगा प्रकृति का सुख नहीं रहेगा सुख तो बहुत थर्ड क्लास है ईश्वर का सुख इससे बढ़िया मिल रहा है फिर इसका सुख क्यों लेगा जिसको गुलाब जामुन खाने को मिलते हो वो अचार चटनी से रोटी क्यों खाएगा सूखे चने क्यों खाएगा तो बढ़िया चीज खाएगा तो जिसको ईश्वर का मोक्ष का सुख मिल रहा बढ़िया तो प्रकृति का घटिया ये कच्चे बेर खट्टे खट्टे ये क्यों खाएगा इसका इसका सुख नहीं लेगा वो सिर्फ जानकारी करेगा ऐसी बात अभी पाठ पढ़ते हैं अतश्च अतश्च दृग्दर्शन दृग्दर्शन शक्तोर शक्तोर नित्यत्वात् नित्यत्वात् अनादि अनादि संयोगो संयोगो व्याख्यातः व्याख्यातः इति तो अतश्च इसीलिए इसी कारण से दृग्दर्शन दर्शन शक्तियों दृक शक्ति का और दर्शन शक्ति का दृक शक्ति देखने वाली शक्ति जीवात्मा ठीक है चेतन जीवात्मा दर्शन शक्ति दिखाने वाली शक्ति तो दिखाने वाली शक्ति बुद्धि है पहले हम पढ़ चुके हैं अस्मिता क्लेश में दृक शक्ति जीवात्मा दर्शन शक्ति बुद्धि अब बुद्धि का नाम लिया तो फिर सारी चीजें साथ ही आती हैं अकेली तो बुद्धि आती नहीं हम्म? एक ने जब मुख्यमंत्री जी को बुलाया तो अकेले थोड़ी आएंगे पूरा काफिला साथ में आएगा है डॉक्टर भी आएंगे पुलिस वाले भी आएंगे उनके पीए भी आएंगे कलेक्टर साहब भी आएंगे और डीएसपी भी आएंगे सब लोग आएंगे पूरा काफिला ही आएगा साथ में खाली बोलने को मुख्यमंत्री जी को बुलाया तो पूरा ग्रुप आएगा साथ में ऐसे ही बुद्धि का नाम लिया तो पूरा काफिला आएगा मन भी होगा इंद्रिया भी शरीर भी सब कुछ साथ आएगा तो इस प्रकार से दृक शक्ति और दर्शन शक्ति का इन दोनों का मतलब जीवात्मा और सब शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का नित्यत्वात प्रवाह से नित्य होने से क्योंकि जीवात्मा तो स्वरूप से नित्य है पर मन बुद्धि इंद्रिया तो स्वरूप से नित्य नहीं ये तो प्रलय में टूट जाएंगी फिर ईश्वर नहीं बनाएगा और जैसे ही नई सृष्टि बनेगी नए शरीर मन इंद्रिया मिलेंगे फिर जीवात्मा के साथ सहयोग कर देगा तो इस प्रकार से प्रत्येक सृष्टि में ये बनती रहती है नष्ट होती रहती है तो प्रवाह से अनादि नित्य होने के कारण इनका अनादि संयोग व्याख्या था इनका संयोग भी अनादिकाल से कहा गया है तो अनादिकाल से प्रवाह से अनादि अर्थात जब से जीवात्मा मुक्ति से लौटकर आया तब से जीवात्मा को ईश्वर ने मन बुद्धि इंद्रिया शरीर जोड़ दी आगे दोबारा मोक्ष में जाने के लिए कि लो भाई दोबारा नए कर्म करो आपको ये साधन देते हैं संसार में अपना पिछला जो बचा कर्म है उसका फल भी भोग लो और आगे नए नए अच्छे अच्छे कर्म करो दोबारा मोक्ष में जाओ इसलिए आपको ये सारे साधन दिए जाते हैं तो अब जब जीवात्मा मुक्ति से लौट कर आया और उसका पहला जन्म हुआ मुक्ति के बाद तो फिर वो खाया पिया भोगा फिर यहां फंस गया अविद्या में फंस गया कुछ माता पिता ने कुछ पड़ोसियों ने कुछ मित्रों ने कुछ समाज वालों ने उसको अविद्या में बांध दिया और वो भी अच्छी तरह फंस गया तो एक जन्म दो जन्म हजार जन्म लाख जन्म कितने ही जन्म तक वो यहां पर बेचारा दुख भोगता रहता है फिर बहुत मुश्किल से समझ में आती है फिर चला जाता है मोक्ष में मोक्ष का समय पूरा हो गया फिर लौट के आया फिर फंस गया इस तरह से उसका जो संबंध होता रहता है आत्मा का इन शरीर आदि पदार्थों के साथ वो प्रवाह से अनादिकाल से है अर्थात ऐसा कोई अवसर नहीं था जब पहली बार जीवात्मा को ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिया दिए गए हो जब पहली बार संसार बनाया गया हो ऐसा कोई नहीं था ये अनादिकाल से चल रहा है जीवात्मा अनादिकाल से कर्म कर रहा है ईश्वर उसको अनादिकाल से फल दे रहा है अनादिकाल से सृष्टि बन रही है अनंत काल तक चलता है हम मोक्ष में चले जाएंगे अपना कर्म फल भोगेंगे उसके बाद फिर वापस आएंगे लोग कहते हैं साहब एक बार छुट्टी हो जाए तो हो जाए जान छूटे फिर बार बार क्यों आना एक बार मोक्ष हो गया तो हो गया करोड़ों व्यक्ति मानते हैं ऐसा कि एक बार मोक्ष हो गया तो फिर वापस कभी नहीं आएंगे पर वो भ्रांति है गलत है वापस आना पड़ेगा बोले क्यों आना पड़ेगा हमने कहा इसलिए आना पड़ेगा कि एक तो आपने मोक्ष के लिए जो कर्म किए वो लिमिटेड थे या अनलिमिटेड थे लिमिटेड लिमिटेड ठीक है ना जीवात्मा अल्प शक्तिमान अनंत कर्म कर ही नहीं सकता उसकी बुद्धि योग्यता सामर्थ्य नहीं क्षमता ही नहीं तो सीमित कर्म करेगा तो न्याय का नियम है कि सीमित कर्मों का सीमित फल होता है लिमिटेड कर्मों से अनलिमिटेड फल तो नहीं मिल सकता तो जब आपके मोक्ष के कर्म लिमिटेड थे तो मोक्ष फल अनलिमिटेड क्यों होगा ईश्वर न्यायकारी है वो कहता है आपने एक महीना काम किया एक महीना का तनख्वाह ले जाओ आप कहते हैं दूसरे महीने फिर तनख्वाह चाहिए तो ईश्वर कहता है दोबारा काम करो फिर दोबारा देंगे हमको अन्याय थोड़ी करता हम बिल्कुल न्याय करेंगे आपने एक बार कर्म किया एक बार मोक्ष दे दिया अगली बार फिर कर्म करो दोबारा फिर देंगे तीसरी बार फिर करो तीसरी बार फिर देंगे तो जितनी बार मोक्ष के कर्म करोगे उतनी बार आपको मोक्ष फल देंगे इस तरह से हमको बार बार लौट के आना पड़ता है ईश्वर न्यायकारी है और हम अनंत कर्म कर नहीं सकते इसलिए अनंत काल के लिए मोक्ष नहीं होगा तो आते रहेंगे जाते रहेंगे ये क्रम चलता रहेगा अब दो स्थितियां हैं हमारी एक तो संसार में रहना एक मोक्ष में रहना जो प्रलय अवस्था वो तो विश्राम की एक तरह से थोड़ा सा रेस्ट मार लिया बस बाकी तो वो तो कोई अच्छी चीज नहीं है जिसमें कुछ फायदा है वो तो दो ही तरह की स्थिति है या तो संसार में रहेंगे या मोक्ष में रहेंगे संसार में रहते हैं तो थोड़ा सा सुख मिलता है बहुत सारा दुख मिलता है दस बीस परसेंट सुख मिलता है और अस्सी परसेंट दुख मिलता है और मोक्ष में रहते हैं तो सौ परसेंट सुख मिलता है एक परसेंट भी दुख नहीं होता अब आप पढ़े लिखे हैं हिसाब किताब जानते हैं लगा लीजिए हिसाब कौन सा स्थिति रहना अच्छा है कौन सी स्थिति में रहना अच्छा है मोक्ष बस तो फिर करो तैयारी मोक्ष इसलिए हमको मोक्ष में जाना चाहिए तो जो इस बात को समझता है वो मोक्ष में चला जाता है चलिए आगे पढ़ते हैं तथा तथा च उक्तम च उक्तम धर्मिणाम धर्मिणाम अनादि संयोगा अनादि संयोगा धर्म मात्राणाम धर्म मात्राणाम अपि अपि अनादि अनादि संयोग संयोग इति तो कहते हैं धर्मियों का अनादि संयोग होने से धर्मों का भी संयोग अनादि है यह दो एक जीवात्मा दूसरा प्रकृति ये दोनों धर्मी है धर्म धर्मी शब्द के अनेक अर्थ हैं अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होते हैं एक तो भाई सच बोलना ईमानदारी से काम करना ये धर्म है सबके साथ न्याय करना ये धर्म है अन्याय करना अधर्म है झूठ बोलना अधर्म है वो तो आचरण रूप धर्म है वो अलग बात है यहां उसकी बात नहीं है यहां धर्मी कहते हैं द्रव्य को पदार्थ को वस्तु को उसको कहते हैं धर्मी और उस वस्तु से जो कुछ उत्पन्न होता है या उसके अंदर कुछ गुण हो उन गुणों को कहेंगे धर्म या तो गुण होंगे उनको धर्म कहेंगे या किसी रॉ मटेरियल से कोई चीज उत्पन्न हुई प्रोडक्ट हुआ उसको भी धर्म कहते हैं तो यहां इस परिभाषा में धर्म धर्मी का अर्थ लेना है तो जीवात्मा एक धर्मी है अब जीवात्मा से कुछ प्रोडक्शन तो होता नहीं वो रॉ मेटेरियल तो है नहीं किसी चीज का उपादान कारण तो है नहीं तो यहां धर्मी का अर्थ होगा जीवात्मा एक पदार्थ है और इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि इसके गुण है ये उसके धर्म है इन धर्मों को उसने धारण कर रखा है इन गुणों को विशेषताओं को उसने धारण कर रखा है इसलिए वो धर्मी और जो दूसरा धर्मी है वो है प्रकृति जो भी द्रव्य है प्रकृति जो धर्मी है तो इसके जो धर्म है वो है इससे उत्पन्न हुए पदार्थ बुद्धि मन इंद्रिया अहंकार और ये खाना पीना शरीर अनाज फल फूल वनस्पति इत्यादि ये सारा जो जगत है ये धर्म है तो मूल प्रकृति धर्मी है और उससे उत्पन्न हुआ जगत उसका धर्म है तो अब कहते हैं धर्मियों का संयोग अनादि होने से तो धर्मी कौन कौन जीव और प्रकृति जीव और प्रकृति तो जीव और प्रकृति का संयोग अनादि है प्रवास अनादि है वो बार बार संसार में आता है फिर बार बार मोक्ष में जाता है तो ये अनादिकाल से चल रहा है इस प्रकार से इन दोनों का संयोग अनादि होने के कारण धर्म मात्राणाम अपनी अनादि संयोग तो प्रकृति से जो उत्पन्न पदार्थ है बुद्धि मन इंद्रिया आदि इन सब का भी जीवात्मा के साथ जो संयोग है वो भी अनादि है तो जीवात्मा लौटेगा दुनिया में मोक्ष से और ईश्वर उसको नए नए प्रकृति के पदार्थ बना बना के जोड़ देगा फिर चलो नए कर्म करो मोक्ष में जाओ फिर एक जन्म में मोक्ष तो होता नहीं फिर एक जन्म जोर लगाया थोड़ा सा ही काम हुआ फिर दूसरा जन्म तीसरा जन्म ऐसे बार बार वो जन्म लेता रहता है और ये शरीर आदि पदार्थ उसके साथ संयुक्त होते रहते हैं और इनकी सहायता से फिर धीरे धीरे वो मोक्ष में पहुंच जाता है इस प्रकार से उसका संयोग अनादिकाल से चल रहा है मतलब ये चक्र अनादि है बाकी तो समय समय पर छूटता और जुड़ता रहता है हाँ जी छूटता रहता है जुड़ता रहता है छूटता रहता है जुड़ता रहता है छूटने और जुड़ने का जो चक्र है क्रम है वो अनादि वो कभी शुरू नहीं हुआ इसलिए ये क्रम कभी समाप्त भी नहीं होगा तो फिर कहते हैं कि हम हमेशा इस चक्कर में पड़े ही रहेंगे हाँ तो ये सच है ना इसमें सच को स्वीकार करो इसमें क्या बात ईश्वर भी तो चक्कर में बंधा हुआ है ना आपके साथ <laughs> आप अकेले थोड़ी है वो भी तो साथ में आपके वो भी तो आपके लिए बनाता ही रहेगा ना उसका काम कब खत्म होने वाला है आप चाहते हैं हमारा काम खत्म हो जाए वो नहीं होगा ईश्वर का भी तो खत्म नहीं होगा एक बीच में जो क्या लाया सुनाता हूं एक कोई सैनिक था सैनिक अधिकारी था कोई कैप्टन वैप्टन मांग लो ऐसा तो वहां सेना में क्या नियम है कि छोटा अधिकारी जो है वो बड़े अधिकारी को देखकर सैल्यूट मारता मारते पुलिस में भी सेना में भी ऐसे नियम होते हैं कि बड़ा ऑफिसर आए तो उसको सैल्यूट मारना चाहिए तो वो बड़ा अधिकारी जा रहा था उसके सामने से एक छोटा अधिकारी आया और उसने ध्यान नहीं दिया कि हमारे बड़े अधिकारी हैं और उसको सैल्यूट मारना था वो भूल गया और बड़े अधिकारी ने नोट कर लिया कि इसने मुझे सैल्यूट नहीं मारा उसको बुलाया उसका कोर्ट मार्शल कर दिया तुमको दंड मिलेगा तुमने मुझे सल्यूट नहीं मारा हाँ साहब गलती होगी बोलो क्या दंड सौ बार सल्यूट मारो अब उसमें एक दूसरा नियम यह भी है कि जब छोटा सल्यूट मारे तो बड़े को उसको जवाब देना पड़ता है अब दंड क्या दिया मुझे सौ बार सल्यूट मारो ये बोलेगा कि मुझे भी सौ बार मारना पड़ेगा <laughs> तो बोलिया ना बेचारा वो खुद भी फंस गया उसको तो बोला सौ बार सैल्यूट मारो और ये नहीं ध्यान रहा कि मुझे भी वापस सौ बार मारना पड़ेगा <laughs> तो लोग कहते हैं जी हम हम जीवात्मा है हमारा तो चक्कर कभी खत्म नहीं होगा बिल्कुल ठीक है जीवात्मा का चक्कर खत्म नहीं होगा ये भी तो सोचो ना कि ईश्वर का भी तो खत्म नहीं होगा हमको उसको सैल्यूट मारना है तो वो भी तो साथ फंसेगा ना हमारे तुम भी बनाओ सृष्टि बस उसमें और हमें अंतर यह है कि वो चक्कर चलाता रहेगा दुखी नहीं होगा और हम इस चक्कर में फंस जाएंगे और दुखी हो जाएंगे इतना ही अंतर है उसको कोई कष्ट नहीं भले ही चक्कर चलता रहेगा उसका इसलिए वो समस्या नहीं है वो समस्या नहीं है यूं टेंशन में मत आओ कि भगवान भी चक्कर में फंस गया है वो भी परेशान हो गया है वो भी बंधन में आ गया है वो बंधन में बिल्कुल नहीं है वो स्वतंत्र है मस्त है आनंदित है उसके पास इतनी क्षमता है योग्यता है उसकी भावना भी है सेवा की परोपकार की वो अपनी भावना से करता रहेगा कठिनाई तो हमको है हम अल्प शक्तिमान उसको कोई कठिनाई नहीं पर ये चक्र दोनों का बराबर चलता रहे बस ये सत्य है इसको समझना हाँ जी अब बोलिए शंका शंका ये हर समाज के सदन के हिसाब से हम्म। अगर मोक्ष में जाना है जी बिल्कुल बनना पड़ेगा ठीक है जी तो और जितने भी धर्म धर्माचार्य है ना जी कोई भी ऐसा नहीं बोलता है वो हम्म। बताए गलत में भी आपको मोक्ष मिल सकता है ठीक बात तो हकीकत क्या है हकीकत यह है जो वेद कहता है जो हम कहें वो हकीकत नहीं है हम तो, तो इंसान है हम भूल कर सकते हैं कोई भी मनुष्य भूल कर सकता है ये अन्य संप्रदाय वाले जो बोलते हैं हाँ। या अन्य वक्ता जो बोलते हैं चाहे वो समाज के भी क्यों ना हो जो लोग ये कहते हैं कि गृहस्थ में रहते रहते यहीं से डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा जो लोग ऐसी बात कहते हैं ये उनकी अपने घर की बात है ये मनुष्यों की अपनी बात है तो मनुष्यों की बात कोई प्रामाणिक नहीं है वो गलत हो सकती है तो उनकी बात ठीक है या गलत इसकी कसौटी क्या पहचान क्या वो तो अंतिम ईश्वर है वेद है हम्म। तो वेद जो कहेगा वो मान्य है अगर वेद कहता है गृहस्थ में रहते रहते मोक्ष हो जाएगा तो हम मान लेते हैं हमें क्या दिक्कत है हमें कोई झगड़ा थोड़ी किसी से ना कोई द्वेष है ना झगड़ा वेद में साफ लिखा है वेद में साफ लिखा है गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा अगर गृहस्थ से सीधा डायरेक्ट मोक्ष हो जाता हम्म। तो ईश्वर दो ही आश्रम बताता ना तीसरा बताता ही क्यों वो कहता ब्रह्मचारी बनो गृहस्थी बनो और मोक्ष में जाओ तीसरे की जरूरत ही क्या थी चौथे की क्या जरूरत थी अगर दूसरे से ही मोक्ष हो जाता तो तो ईश्वर ने देखा दो से मोक्ष होने वाला नहीं इसलिए तीसरा होता है तीसरा करो वनप्रस्थ करो फिर देखा वनप्रस्थ से भी मोक्ष नहीं होने वाला इसलिए चौथा बनाया आप गाड़ी में कार में कितने पुर्जे लगाएंगे जो काम के फालतू पुर्जे लगाएंगे जिसका कोई यूज नहीं जब कोई यूजलेस स्पुर आप नहीं लगाते तो यूजलेस आश्रम ईश्वर क्यों बनाए उसने चार आश्रम बनाए चार वेदों में बताया चार आश्रम है तो फालतू क्यों बनाएगा अगर गृहस्थ से ही मोक्ष हो जाता तो बाकी दो आश्रम का विधान नहीं करता वो पर बाकी दो आश्रम भी बताया ईश्वर ने गृहस्थ तो संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है ये बात मैं कई जगह बोलता हूं आप भी दोहरा लीजिए गृहस्थ संसार के सुख और दुखों के परीक्षण करने की प्रयोगशाला है हाँ ये तो प्रयोगशाला है अभी तो लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे कितना सुख और कितना दुख और वो 25 साल में समझ में आ जाएगा जी <laughs> इसका मतलब ये हुआ कि गृहस्थ से वन परस में जाना पड़ेगा जाना ही पड़ेगा सीधा सन्यासी नहीं बन सकता कोई कोई बन सकता है जो पिछले जन्मों में तपस्या करके आया हो एक्सेप्शन आर एवरीवेयर अपवाद सब जगह होते हैं वो वही जा पाएगा जो पिछले जन्मों में ये साधना कर चुका है वो तो शॉर्टकट मार लेगा गृहस्थ से सीधा सन्यासी कोई करोड़ों में एक आध होगा सामान्य नियम तो यही है कि गृहस्थ पूरा हो जाए तो वनप्रस्थी बनो फिर साधना करो तपस्या करो क्योंकि 25 साल में ये समझ में आ जाएगा कितना सुख और कितना दुख जिस प्रयोजन से आए थे गृहस्थ में वो पूरा हो गया पूरा हो गया तो आगे चलो आपकी गिनती जो है सौ बरस गया है की उम्र सौ बरस तो है नहीं हाँ नहीं है नहीं है इसलिए तो मोक्ष एक जन्म में नहीं होता <laughs> मोक्ष एक जन्म में नहीं होता है कई जन्म तपस्या तो करनी पड़ेगी जितनी हो जाए उतनी सही अब 25-26 साल में 28 साल में शादी होती है आजकल तो पढ़ पढ़ गई पच्चीस अट्ठाईस साल हो जाती उम्र सही है पच्चीस अट्ठाईस में तो शादी होती है और पच्चीस सत्ताईस साल आप गृहस्थ के गिन लो तो पचपन की उम्र हो जाती है पचपन सत्तावन में आकर के वो वानप्रस्थ में आ गया हाँ। अब पचपन सत्तावन में शक्ति घट जाती है शरीर में वो सारी शक्ति गृहस्थ में खर्च कर देता है आदमी वानप्रस्थ के लिए बचती ही नहीं तो वानप्रस्थ में कोई ज्यादा मेहनत कर नहीं पाता वो तपस्या तो कर नहीं पाता बल्कि कई होगी तो पचपन सत्तावन तक इतनी घट जाती है कि वो वानप्रस्थ लेने की हिम्मत ही नहीं करता वो कहता भाई आप अब तो शरीर ढीला हो गया वहां जाके तो क्या करेंगे वहां तो तपस्या करनी पड़ेगी इतनी शक्ति है नहीं तो अपने घर में ही रह लो तो वो प्लस लेता ही नहीं वो घर में ही रहता है कोई कोई हिम्मत वाला होता है जो पहले से तैयारी करता है कि मुझे प्लस लेना है तो वो क्या करता है शक्ति बचा के रखता है गृहस्थ में पूरी शक्ति खर्च नहीं करता <clears throat> कुछ शक्ति बचा लेता है तो बावन पचपन में वो प्लस में चला जाता है तो दस पंद्रह साल वो तपस्या करता है तो पैंसठ सत्तर तक उसकी अच्छी तपस्या हो जाती है वनप्रस्थ की फिर वैराग्य हो जाता है फिर वो कोई कोई संन्यास लेता है पैंसठ में सत्तर में <clears throat> अब दस साल और जिएगा तो दस साल समाज सेवा भी कर लेगा तो एक जन्म में काम पूरा नहीं हुआ थोड़ी थोड़ी योग्यता बनी अब ये ये जो संस्कार बने जो जितनी योग्यता बनी ये वो अपने साथ ले जाएगा अगले जन्म में तो अगले जन्म में ये ये संस्कार उसके साथ चलेंगे और बचपन से उसको प्रेरित करेंगे और बचपन से उसको कहेंगे भाई मोक्ष में चलना यहां नहीं चलना संसार में नहीं जाना मुझे समझ में आ रहा है यहाँ कुछ नहीं दिख रहा सभी दुखी है बेचारे सब परेशान है तो ये संस्कार उसको बचपन से आगे प्रेरित करेंगे <clears throat> फिर वो अगले जन्म में और मेहनत करेगा थोड़ी और योग्यता बनेगी ऐसे दो चार पांच दस बीस जन्म जो मेहनत करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा वो तो हर एक की गति और पिछली संपत्ति के ऊपर आधारित है कोई एकाध जन्म में तो मोक्ष होता नहीं इस तरह से ये चलेगा ठीक है मोक्ष से जो वापस आता है जी कंप्यूटरली ज्यादा पवित्र होता है नहीं बिल्कुल नहीं होता दूसरों के कंपेयर में नहीं नहीं नहीं होता जो मुक्ति से लौटता है वो सामान्य व्यक्ति होता है आपको आपने एक हजार एक महीना काम किया दस हजार रूपये वेतन मिला आपने सारा वेतन खा लिया तो अब आपकी जेब में दो हजार बाकी बचेंगे या जीरो से चलना पड़ेगा आपको जितना वेतन मिला सारा खा लिया आपने तो अब तो जीरो हो गया ना जेब में बैलेंस तो जितने कर्म किए उसका फल मोक्ष में भोग लिया वो तो सारा भोग लिया अब तो फिर जीरो से चलना है अब वो कंपेरेटिव अच्छा क्यों होगा बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल सामान्य व्यक्ति होगा जैसे सामान्य मजदूर चपरासी परिवार होता है ऐसे मजदूर चपरासी शूद्र परिवार में उसको जन्म मिलेगा मुक्ति से लौटकर ये जीरो माइल है कोई भी यात्रा जीरो माइल से स्टार्ट होती है आप घर से चलेंगे ना तो कार में मीटर पे देखेंगे जीरो फिर पूरा ट्रिप लगा के आएंगे महाबलेश्वर फिर आगे देखेंगे कितना किलोमीटर है तब पता चलेगा तो शुरू कहां से किया था गिनता गिनना शुरू कहां से किया जीरो से तो मुक्ति से लौट के वापस आए तो यहां से जीरो से एक बात है जीरो का मतलब है सामान्य परिवार ये है जीरो माइल पशु पक्षी में गए तो माइनस और अच्छे सेठ के घर जन्म लिया तो प्लस वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण ये प्लस है और पशु पक्षी माइनस है और शूद्र जो है वो बीच में इन दोनों के तो जो बीच में होता है वो जीरो होता है इसलिए जीरो से स्टार्ट होगी कोई भी यात्रा तो मुक्ति से लौटकर हम पहले सामान्य मनुष्य बनेंगे और फिर हमारे लिए दोनों तरफ रास्ता खुला है मोक्ष में जाओ या कुत्ते गले बनो जो मर्जी बनो आपकी मर्जी इस तरह से हाँ बोलिए इसमें एक बात बनती है कि हम्म। जब आदमी मोक्ष में जाता है हम्म। तो उसके साथ कुछ कर्म ऐसे रह, हम्म। रह भी जाते हैं तो पीछे अगर जीरो से चलेगा चलेगा हम्म। तो वो कर्मों का क्या कर्मों का फल ये मिला जीरो जीरो का मतलब शरीर जो परिवार मिला ना वो जीरो है कर्मों का फल से तो मिला है शरीर अगर कर्म जीरो होते तो शरीर ही नहीं मिलता शरीर जो मिला मुक्ति से लड़कर पहला शरीर वो कर्म के आधार पे मिला हम्म। कर्म बचे हुए थे तभी तो शरीर मिला पर किस कैटेगरी का मिला हम्म। वो जीरो लेवल का मिला वो ऊंचे लेवल का नहीं मिलेगा ये ईश्वर का न्याय है तो कर्म तो मिला फल फल शरीर तो मिला कर्मों के फल से ऐसे फ्री में नहीं मिला इसलिए कर्म ईश्वर बचा के रखता है हम्म। वो हमसे ज्यादा समझदार बचा के रखता है पहले से सारा खिला दूंगा तो फिर आगे क्या खाएंगे इसलिए पहले से कर्म बचा के रखता है उन्हीं बचे कर्मों से लौट के हमको पहला शरीर मिलता है मुक्ति से लौट कर और वो मिलता है जीरो लेवल का अब आपकी इच्छा है आप स्वतंत्र है इधर जाओ या इधर जाओ दोनों दिशाएं खुली आपके लिए अब अगर ये माना जाए कि जो मुक्ति से लौट रहा है वो औरों की कंपेरिजन में बहुत अच्छा है ठीक है तो वो तो फिर फटाफट दो चार जन्म में मोक्ष में चला जाएगा हाँ। ठीक है तो ये जो आज पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये कहां से आए ये कैसे बन गए इसका जवाब देना आपको इसका जवाब दीजिए जो भी मुक्ति इसमें से आएगा वो दो चार जन्म में चला जाएगा क्योंकि औरों से तो ऊंचा है तो उससे जो घटिया लोग यहां जी रहे हैं वो घटिया कहां से पैदा हो गए क्या वो भी तो मुक्ति से ही आए थे ना पचास जन्म पहले सौ जन्म दो सौ चार सौ जन्म पहले वो भी तो मुक्ति से आए थे जब वो मुक्ति से आए थे वो कुत्ते गधे क्यों बन गए अगर वो बन सकते हैं नीचे उतर के तो ये जो आए ये भी बनेगा और अगर वो भी मुक्ति से आए थे तो वो भी दो चार जन्म में चले जाते तो घटिया तो कोई बचेगा ही नहीं सारे ही बढ़िया होंगे पर यहां सारे बढ़िया तो नहीं है यहाँ तो घटिया लोग हैं और घटिया से भी घटिया लोग हैं आप देखते हैं दिल्ली में क्या घटना हो रही है ये रोज दुर्घटनाएं चल रही हैं ये घटिया घटिया लोग एक से एक बढ़कर घटिया होते जा रहे हैं घटिया ही घटिया होते जा रहे हैं उनके रोज के कारनामे ऐसे तो दंड व्यवस्था फेल हो जाने से ये परिणाम होता है व्यक्ति नीचे नीचे गिरता जाता है वो कर्म करने में स्वतंत्र है जब दंड नहीं मिलता तो और बुरे बुरे काम करता है फिर ईश्वर उसको दंड देता है तो इस तरह से सिद्धांत यही बनेगा कि मुक्ति से जब लौट कर आएंगे तो पहला जन्म जीरो माइल पर मिलेगा सामान्य मनुष्य का अब वहां से हम स्वतंत्र हैं चाहो तो मोक्ष की तरफ चलो चाहो तो बुरे काम करो और कीड़े मकोड़े बनो ये व्यवस्था है ठीक है अच्छा जी अगर उसको अभी जीरो माइनस हम्म। तो परमात्मा ने कितने कर्म उसके बचाए होंगे जिसके आधार पर उसको ये जन्म दी क्योंकि जो उसके कर्म थे उनका फल तो मुक्ति में मिल गया जी अब वो पूरे कर्म तो डिजोल्व हो गए ठीक है अब कुछ बचा नहीं तो अब किस आधार पे उसको जन्म मिला है हम्म। जी इसका उत्तर यह है कि दो प्रकार के कर्म है एक है सकाम कर्म दूसरे है निष्काम कर्म सकाम कर्म का फल है जाति आयु भोग जो हम पढ़ चुके हैं अभी पढ़ा था थोड़े दिन पिछले सूत्रों में तेरहवें सूत्रों में पढ़ा था जाति आयु भोगा तो सकाम कर्मों से तो जाति आयु भोग फल मिलता है और जो निष्काम कर्म है उससे मोक्ष फल मिलता है तो निष्काम कर्मों से तो मोक्ष फल भोग लिया वो खत्म हो गए सकाम तो अभी स्टॉक में पड़े बीस हजार तीस हजार पचास हजार कितने हैं पता नहीं हमें जो भी होंगे वो बहुत सारे स्टॉक में पड़े हैं बीस तीस पचास हजार और हम कल्पना करते हैं समझने की दृष्टि से फॉर एग्जाम्पल कि उसमें तीस हजार हमारे पुण्य है और बीस हजार पाप भी है ऐसे टोटल पचास हजार तो ईश्वर जब पहला जन्म देता है तो ऋग्वेद के भाषा में लिखा है पाप पुण्य तुल्य तुल्यतया पाप पुण्य तुल्य होकर के ईश्वर मुक्ति से लौटाता है और उसको जन्म देता है अब स्टॉक में मान लीजिए पड़े तीस हजार पुण्य और पाप पड़े बीस हजार तो तुल्य तो नहीं हुए तो ईश्वर कैसे फल देगा तीस हजार पुण्यों में से तीन हजार पुण्य निकालेगा बीस हजार पाप में से तीन हजार पाप निकालेगा तो तीन और तीन पुण्य हो गए बराबर पाप पुण्य बराबर हो गए तो पचास में से छह हजार का एक जन्म दे देगा ऐसा होगा अब पिछले स्टॉक में चाहे तीस हजार पुण्य हो चाहे पच्चीस हजार पुण्य हो चाहे बीस हजार हो जितने भी हो सारे कर्मों का फल तो ईश्वर देता ही नहीं एक साथ कुछ तो हमेशा स्टॉक में रहते ही रहते हैं तो इसलिए स्टॉक में जो सकाम कर्म बचे हुए हैं पचास हजार सबका पचास हजार का एक जन्म थोड़ी मिलेगा कुछ ही कर्मों का मिलेगा और वो जो कुछ कर्म होंगे वो बराबर होंगे पुण्य में से तीन हजार निकालेगा पाप में से तीन हजार दोनों इक्वल हो गए साधारण मनुष्य का जन्म मिल जाएगा पाप पुण्य तुल्य होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है ये बात सत्यार्थ प्रकाश के नौवे समोल्लास में लिखी है अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं मैच करते हैं तो फिर सारी ये निकलता है कि सामान्य मनुष्य तो शूद्र ही होता है वैश्य को तो सामान्य नहीं कह सकते वो तो शूद्र की अपेक्षा विशेष है और क्षत्रिय उसकी अपेक्षा विशेष है ब्राह्मण उसकी अपेक्षा विशेष है तो विशेष में ये तीन आएंगे वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण ये तो विशेष हो गए और शूद्र जो है वो इनसे छोटा है सामान्य है नॉर्मल मैन कॉमन मैन सबसे सामान्य वही होता है पशु पक्षी तो फिर गए कोटी से नीचे उतरे वो तो मनुष्य से भी नीचे उतर गए इसलिए सामान्य मनुष्य का अर्थ शुद्र समझना चाहिए तो इस तरह से पहला जन्म शुद्र क्या मिलेगा जी ये पैदा होता है हम्म। कि ईश्वर अगर कर्म घटाता है बढ़ाता है हम्म। सकाम कर्म पचास पांच सौ है जी उसमें से इक्वल करने के लिए सामान्य करने के लिए वो कम करते हैं जी कम करने पर ये अन्याय नहीं हुआ हमारा कम थोड़ी किया तो उसमें से कुछ निकाल के दिए कम कहांगे खा थोड़ी जाएगा कम ही तो हुआ ना कम नहीं किया भाई आप सेठ हैं आपके पास एक नौकर काम करता है वो हर महीने तनख्वाह लेता है और वो कहता है मेरे पास बैंक की सुविधा नहीं है मेरे पैसे आप जमा करते रहो थोड़े थोड़े सौ सौ रूपये आपको जमा करता रहता है फिर वो कहता है जी मेरे बहुत सारे जमा हो गए मुझे पांच सौ रुपये चाहिए खर्चा आ गया एक जरूरी वो आपसे पांच सौ रुपये निकलवा लेता है अपने कैश बैलेंस में से तो आपने पांच सौ दे दिए बाकी उसके आपके पास बचे हुए हैं तो कम थोड़ी को कम थोड़ी खा दी थोड़ी थी आपने खा तो नहीं ना उसके पैसे उसने 500 मांगे आपने 500 दे दिए बाकी बचे हुए हैं वो जब मौका आएगा तब और दे लेगा तब आप उसको देंगे तो कम काम किया आपने सरकार भी तो पीएफ वगैरह वैसे ही करती है पीएफ काटती रहती है <coughs> अब बाद में इकट्ठा दे देती है तो सरकार खा थोड़ी जाती है सामान्य करने के लिए ये करना पड़ता वो तो वो तो व्यवस्था है ईश्वर के सिस्टम है कि भाई आपको पचास हजार में से छह हजार कर्मों का पहला जन्म मिलेगा उसका सिस्टम है फल देने में उसका कानून चलता है हमारा नहीं चलता वो हमारी मर्जी से फल नहीं देता वो अपने हिसाब से देता कर्म करना हमारी मर्जी से फल देना उसकी मर्जी से आपको स्वीकार हो तो उसका शासन स्वीकार कर लो नहीं हो तो अपना जाओ कमाओ और खाओ अपना स्वयं कर्म करो और स्वयं फल ले लो ले सकते नहीं <laughs> फिर शुद्र तो सेवा करने में ही ज्यादा समय उसका चला जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके पास समय नहीं होता हाँ, नहीं होता हम देखते हैं सवेरे चार बजे से लगे रहते हैं रात में ग्यारह बजे तक जी जी फिर उनकी सिद्धि कैसे यानी प्रगति कैसे होगी हाँ, प्रगति कैसे होगी उनकी प्रगति ऐसे होगी कि इस जन्म में एक शूद्र ने पूरी मेहनत की हम्म। ईमानदारी से की जितनी बुद्धि है उतना काम किया ठीक ठाक अपनी ड्यूटी कंप्लीट की तो ये जो उसने पूरी ईमानदारी से कर्म किया ये उसका पुण्य कर्म है इसके आधार पे अगले जन्म में ईश्वर उसको किसी वैश्य के यहां पैदा कर देगा ऐसे प्रमोशन होगा यहां अच्छा काम किया ना आपने बैंक में ऑफिसर हैं तीन साल पुणे में बहुत अच्छा काम किया तो बैंक का जो मैनेजमेंट है आपको प्रमोशन देगा बैंगलोर भेज देगा यहां आप क्लर्क थे वहां अकाउंटेंट बना देगा तो प्रमोशन होगी ना और स्थान बदल दिया और प्रमोशन होगी तो शूद्र पूरी ईमानदारी से यदि काम करता है तो अगले जन्म में ईश्वर उसको वैश्य पैदा कर देगा हो गया प्रमोशन अब वहां उसको बढ़िया अवसर मिल जाएंगे खाना पीना सुविधा पढ़ाई लिखाई माता पिता पुस्तक कापी सब कुछ मिल जाएगा फिर आगे वो स्वतंत्र है अब और अच्छे ईमानदारी से वैश्य वाला काम करे तो अगले जन्म में उसको ईश्वर क्षत्रिय ज्ञान पैदा कर देगा फिर और मेहनत करेगा तो अगले जन्म में ब्राह्मण बन सकता है जो काम है वो उसमें करना चाहिए यस yes, पूरी ईमानदारी से बुद्धि से पूरी मेहनत से काम करे यही ईश्वर की आज्ञा यही उसकी आज्ञा है <laughs> जो इसका पालन करेगा ईश्वर उसको प्रमोट करता रहेगा उसको आगे आगे प्रोत्साहन देता रहेगा आगे आगे बढ़ाता रहेगा बस यही तो रास्ता है मोक्ष का अपना काम पूरी ईमानदारी से बुद्धिमत्ता से और मेहनत से करना चाहिए तो लोग पूछते हैं हमसे कि गुरु जी हमारा भविष्य कैसा है हम कहते हैं आपका भविष्य अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है वो आपके हाथ में है बोले कैसे बनेगा अच्छा हमने कहा तीन चीज याद कर लो आपका भविष्य बहुत अच्छा है बोले क्या क्या पहली चीज है ईमानदारी ईमानदारी से जियो धोखा मत दो चालाकी मत करो छलकपट मत करो बेईमानी मत करो ईमानदारी से जियो आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा दूसरी बात है बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता से डिसीजन लो मूर्खता से नहीं सोच समझ के दूर तक सोचो कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं इसका रिजल्ट क्या आएगा अच्छी तरह से सोच के फिर काम करो और तीसरी चीज है पूरी मेहनत जो आपने ड्यूटी हाथ में ली है उसमें काम चोरी मत करो पूरी मेहनत करो तो ये तीन चीजें आप पकड़ लेंगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा है कोई समस्या नहीं और तीनों में भी क्रम है प्रायोरिटी है सबसे पहले ईमानदारी दूसरे नंबर पर बुद्धिमत्ता और मेहनत तो तीसरे नंबर पर लोग मेहनत तो खूब करते बुद्धि कम लगाते हैं ईमानदारी नहीं रखते इसलिए मार खाते हैं मेहनत तो कर लेते हैं कई लोग जी बोलिए गृहस्थाश्रम के अगर आप जो महत्व के आप कार्य हैं जी वो कौन से हो सकते गृहस्थ के पंचमहायज्ञ ये गृहस्थ लोगों को हर रोज करने चाहिए पहला है ब्रह्मयज्ञ ईश्वर का ध्यान करना और स्वाध्याय करना जो आप कर रहे हो ये स्वाध्याय तो ईश्वर का ध्यान करें सुबह शाम दोनों टाइम पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा जितना समय निकाल पाए और ये स्वाध्याय करें शास्त्रों का अध्ययन करें अब ये करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा मोक्ष क्या है बंधन क्या है संसार क्या है ईश्वर क्या है हम कौन है ये सारी बातें समझ में आएंगी अगर आप ये स्वाध्याय नहीं करेंगे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आप फिर वही दुनिया की तरह नकल करेंगे थर्टी फर्स्ट मनाएंगे रात को पार्टियों में जाएंगे डांस करेंगे दो दो बजे तक नाचते रहेंगे आपको सारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा फिर बुढ़ापे में आके समझ आएगी कि हमने सारा जीवन खो दिया कुछ कर नहीं पाए तो एक काम ये करना है ईश्वर का ध्यान करना और स्वाध्याय करना ये ब्रह्म यज्ञ हुआ ये गृहस्थ को हर रोज करना चाहिए दूसरा देव यज्ञ जो आप हवन करते हैं सुबह दैनिक यज्ञ करते हैं वो करना चाहिए तीसरा पितृ यज्ञ अपने माता पिता सास ससुर बड़े बुजुर्ग जो है उनकी सेवा करें उनको अच्छी तरह खिलाएं खिलाएं रोगी हो जाए तो दवाई चिकित्सा करें उनसे सभ्यता से भाषा बोलें झगड़ा नहीं करें ऊंचा नीचा नहीं बोले सम्मान से व्यवहार करें कहीं लाना ले जाना हो तो छोड़कर आए लेकर आए सब प्रकार से उनकी सेवा करना ये तीसरा पितृय जी चौथा बलि वैश्वदेव यज्ञ जो अपने आस पड़ोस में गाय घोड़ा कुत्ता कौआ कबूतर चिड़िया मिलते हैं प्राणी कोई रोगी है विकलांग है कोई इस तरह से उनकी सहायता करना उनको खिलाना पिलाना उनकी रक्षा करना ये चौथा काम पांचवा है अतिथि यज्ञ कोई उपदेशक सन्यासी वेद का विद्वान दूसरा नहीं वेद का विद्वान वो है अतिथि फिर उपदेशक सन्यासी हो गृहस्थी हो वैसे तो सन्यासी का ही काम है प्रचार करने का मुख्य तो क्योंकि उसके पास समय भी है उसकी योग्यता भी है अनुभव भी है आचरण भी उत्तम है वैराग्य भी है सब कुछ है तो वो जो चीज बताएगा सिखाएगा पढ़ाएगा तो उसका लोगों पर प्रभाव भी अधिक होगा और लोग लोग उससे लाभ भी अधिक उठाएंगे जो व्यक्ति आचरण करके फिर सिखाता है उसका प्रभाव अधिक होता है और उसको सिखाने का अधिकार भी होता है और जो खुद आचरण नहीं करता खुद उसको वैराग्य नहीं और उपदेश देता है वैराग्य का तो उसका कोई असर ही नहीं होगा और वो इतना अच्छा समझा भी नहीं पाएगा वैराग्य क्या होता है उसको खुद को ही पता नहीं वैरागी क्या होता है वो तो, तो, किताब से पढ़ पढ़ के ऐसे बोल रहा है तो उसका विशेष लाभ भी नहीं होता तो अतिथि असली वही होता है जो सन्यासी है वैराग्यवान है शास्त्रों का विद्वान है वेदों का ऐसा व्यक्ति कोई हर रोज आपके घर पे आना चाहिए हर रोज और हर रोज उसका बैठ के घंटा आधी घंटा प्रवचन सुनना चाहिए जो आप आप सुन रहे हैं रोज की डोज मिलनी चाहिए आपको ये है विधान रोज ऐसा सुनेंगे तो देखो फिर आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी कितनी टेंशन दूर हो जाएगी कितनी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आपका आचरण भी बढ़िया होगा राग द्वेष भी कम हो जाएगा धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा मोक्ष क्या है और कैसे चलना चाहिए गृहस्थ थोड़े दिनों में पार हो जाएगा फिर अपना आगे प्रस और संन्यास तो कोई अतिथि विद्वान सन्यासी उपदेशक का प्रवचन सुनना शंका समाधान करना यथा योग्य उसको भोजन आदि खिलाना उसका जो भी आवश्यकता पूरी करना ये अतिथि यज्ञ कहलाता है तो गृहस्थ व्यक्ति को ये पांच कार्य हर रोज करने चाहिए अब इन पांच में से आप चार तो रोज कर सकते हैं पांचवा नहीं हो पाएगा हो रहा है रिकॉर्डिंग वगैरह सुन सुन हाँ चलो वो थोड़ा बहुत काम चलाओ वो भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग कर लो फिर उसको रोज सुनते रहो थोड़ा थोड़ा ऐसे जितना हो पाए वो भी सही है जितना आज के साधन है इनका लाभ लेना चाहिए पर क्या है आप वो तो लाभ ले लेंगे पर आपका सेवा का काम नहीं हो पाएगा <laughs> सेवा नहीं कर पाएंगे उसकी यथायोग्य सेवा भी करनी चाहिए ना तभी तो उसका पुण्य मिलेगा तो खैर जितना भी हो सके तो महीने दो चार महीने में छह महीने में जब भी अवसर मिले किसी विद्वान का उपदेश सुने सत्संग करें विद्या प्राप्ति करें दो महीने में चार महीने में जब भी अवसर मिले जितना भी मिले कभी उसको अपने घर बुला लें कभी उसके आश्रम में चले जाएं कभी कैसे कभी कैसे जितनी सुविधा हो ऐसा करना चाहिए तो ऐसे करेंगे तो फिर गृहस्थ की उन्नति होती है ठीक है अभी चले हाँ जी तो इस सूत्र का अर्थ रह गया आप अर्थ सुनिए बाईसवें का कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम जो कृतार्थ व्यक्ति है जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया भोग और अपवर्ग दोनों प्रयोजन जिसके कंप्लीट हो गए वो है कृतार्थ ऐसे व्यक्ति के लिए नष्टम ये जगत नष्ट हो चुका यूजलेस अनुपयोगी ऐसा होने पर भी अनष्टम वास्तव में ये खत्म नहीं होगा बना रहेगा और ये अपना भोग देता रहेगा क्यों तद अन्य साधारण उस कुशल व्यक्ति से बाकी लोग जो बचे हुए सांसारिक जिनको अभी रागद्वेश है अविद्या है उनके लिए ये काम का है उपयोगी है तो बाकी लोग इसका लाभ उठाएंगे और धीरे धीरे वो भी इस स्तर पर आएंगे जिस जिसको वैराग्य हो जाएगा वो एक एक करके मोक्ष में चलता जाएगा बाकी लोग इसका लाभ उठाते रहेंगे और वो भी धीरे धीरे आते रहेंगे तो ऐसे एक एक करके सब लोग जाएंगे मोक्ष में जब तक यहां से कुछ लोग मोक्ष में जाएंगे तब तक वहां से वापिस भी आएंगे क्योंकि वापस भी आना बताया था अनंत कर्म हम कर नहीं सकते इसलिए अनंत फल मिलने वाला नहीं तो जब तक कुछ जाएंगे तब तक कुछ वापस भी आएंगे बस ये चक्र चलता रहेगा दुनिया चलती रहेगी कोई पशु बनेगा कोई मनुष्य बनेगा कोई ऑफिसर बनेगा कोई मोक्ष में जाएगा मोक्ष वाला वापस आएगा शूद्र बनेगा वो फिर पाप करेगा फिर गदा सुअर बनेगा तो दुनिया ऐसी चलती रहेगी कभी कभी लोग कहते हैं सारे लोग मोक्ष में चले गए तो ये संसार कैसे चलेगा <laughs> पूछते ना ऐसा शायद कल भी बात चली होगी कल के प्रवचन में आचार्य जी का जो प्रवचन था कल उसमें भी कोई ऐसा टॉपिक चला होगा तो ऐसा मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं कि सारे लोग मोक्ष में जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा तो मैं उनसे कहता हूं अगर सारे लोग चले जाएंगे तो संसार बंद कर देंगे क्या जरूरत है चलाने की <laughs> जब मार्केट में कोई ग्राहक ही नहीं है तो दुकान बंद कर देंगे ठीक है ग्राहक हो तो दुकान खोलो कोई ग्राहक ही नहीं सारे चले गए मोक्ष में तो दुकान बंद कर देंगे तो ईश्वर सृष्टि बनाना बंद कर देगा परंतु ये काल्पनिक बात है ऐसा होगा नहीं ऐसा होगा नहीं खाम खा हमारी चिंता फालतू की टेंशन है सारे मोक्ष में नहीं जाएंगे यहाँ एक करोड़ में एक भी नहीं दिख रहा आप कह रहे सारे चले जाएंगे <laughs> एक करोड़ में एक आदमी भी नहीं दिख रहा जो मोक्ष की योग्यता वाला हो हाँ जी बोलिए अगर ये बात है हम्म। एक करोड़ में एक भी नहीं मिलेगा आ, हाँ, नहीं मिल रहा मुश्क में मुश्किल जो मोक्ष पद है हम्म, हम्म। उसमें भी जाने वाले भी कम मिलेगा हाँ तो कम ही है ना और ज्यादातर ये मनुष्य ही रहेगी बस ऐसे ही जाते रहेंगे आते रहेंगे कोई कोई जाएगा कोई कोई लौटेगा बाकी यही रहेंगे फिर चक्कर काटते रहे संख्या तो मनुष्यों की बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी कभी कीड़े मकोड़े बनेंगे कभी इंसान बनेंगे कभी उधर बढ़ जाएंगे कभी यहां बढ़ जाएंगे मोक्ष तो गिने चुने लोगों का ही होगा जो यहां थक जाएगा दुख भोग भोग के तंग आ जाएगा उसका मोक्ष होगा और जिसको यहां सुख दिखता वो दुखाएगा तो पिएगा पैसे कमाएगा वो मोक्ष में क्यों जाएगा उसकी इच्छा ही नहीं जाने की ईश्वर जबरदस्ती थोड़ी धक्का मारेगा चलो चलो सारे मोक्ष में चलो क्यों चलो कोई मुफत की बस की सैर थोड़ी है शहर बैठा फ्री का थोड़ी है जैसे वो पॉलिटिक्स वाले क्या करते हैं बस भर के ले आओ गांव से फ्री में यहाँ लेक्चर के लिए भीड़ इकट्ठी करो <laughs> वो तो फ्री में बस भर के ले आते हैं तो ईश्वर को कोई लेक्चर थोड़ी देना मोक्ष में चलो भाई सबको भर लाओ इकट्ठे यहाँ पर मोक्ष में तो वही जाएगा जो यहाँ पर थक जाएगा तो अभी थके नहीं है और परीक्षण करो और खाओ पियो और डांस करो फिर जब थक जाएंगे फिर मोक्ष में चलेंगे वैराग्य अभ्यास जी ठीक है जी हाँ आगे चले हाँ तेईसवा सूत्र देखिए इसकी भूमिका में बताते हैं बोलिए संयोग संयोग स्वरूप स्वरूप अभिजित सया अभिजित सया इदम सूत्रम इदम सूत्रम प्रवृते प्रवृते तो दृष्टा बता दिया दृश्य बता दिया दृष्टा और दृश्य का संयोग ये दुख का कारण बताया था दृष्टा जीवात्मा दृश्य संसार इन दोनों का जो संयोग है वो दुख का कारण अब संयोग का स्वरूप बतलाएंगे तो कहते हैं संयोग स्वरूप अभिधित सया संयोग के स्वरूप को कहने की इच्छा से बताने की इच्छा से इदम सूत्रम प्रवृत्ते यह सूत्र प्रवृत्त होता है तो अगला सूत्र इस बात को बताएगा कि संयोग क्या चीज है संयोग क्या है सूत्र तेईस बोलिए स्वस्वामी स्वस्वामी शक्त्यो शक्त्यो स्वरूप स्वरूप उपलब्धि उपलब्धि हेतु हेतु संयोग संयोग ये है संयोग भाष्य में आठ पक्ष बताए गए संयोग के स्वरूप को समझाने के लिए आठ पक्ष बताए गए अलग अलग लोगों के विचार हैं अलग अलग मान्यताएं इस भाष्य से पता चलता है कि ये कोई संप्रदाय आज नए पैदा नहीं हुए महाभारत के बाद जो आज भिन्न भिन्न संप्रदाय चल रहे हैं ईसाई हैं मुसलमान हैं पारसी हैं यहूदी हैं जैन हैं बौद्ध हैं सिख हैं ये सारे के सारे कोई आज नई चीज नहीं चाहिए ये तो अनादिकाल से चल रहा है सबकी बुद्धि अलग है सबके संस्कार अलग है हरेक का चिंतन अलग है तो पक्ष विपक्ष तो पहले भी चलते रहते थे उन्हीं का कुछ नमूना इस भाषा में बता रखा है तो पहले और बातें पढ़ते हैं इन आठ पक्षों से पहले कुछ और बातें भाष्य में बोलिए पुरुष स्वामी स्वामी न दृश्येन स्वेन स्वेन दर्शनार्थम दर्शनार्थम संयुक्त संयुक्त ये जो सूत्र में दो शक्तियां बताई हैं स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दो शक्तियां तो स्वामी शक्ति है जीवात्मा पुरुष स्वशक्ति है ये संसार प्रकृति के बने पदार्थ ये स्वशक्ति है स्व का अर्थ होता है संपत्ति स्वामी का अर्थ है उसका मालिक उसका कंज्यूमर उसका लाभ लेने वाला आपके पास कार है कार आपकी संपत्ति है आप कार का लाभ लेते हैं तो कार का नाम हो गया स्व और आप हो गए स्वामी इस तरह से स्व और स्वामी ये दो चीजें हो गई तो यहां भाष्यकार कहते हैं पुरुष स्वामी ये जो जीवात्मा है ये है स्वामी ये कंज्यूमर है इसका प्रयोग करेगा स्व का स्वेन दृश्य न दर्शनार्थम संयुक्त ये अपने दृश्य के साथ संयुक्त हुआ है तो इसका दृश्य कौन सा है शरीर मन बुद्धि इंद्रिया ये जो जीवात्मा को दिया गया शरीर मन बुद्धि इंद्रिया ये इसका स्व है ये ऐसा स्व है जो 24 घंटे साथ रहता है और कार 24 घंटे साथ नहीं रहती है और मकान में संपत्ति है वो साथ 24 घंटे साथ नहीं रहती है ये तो हर समय साथ रहता है आप देश में जाओ विदेश में जाओ ये तो साथ ही रहता है शरीर मन बुद्धि इंद्रिया तो इन संपत्तियों के साथ जीवात्मा संयुक्त है जुड़ गया चौबीस घंटे साथ जुड़ा रहता है इस प्रकार से क्यों जुड़ा दर्शनार्थम ये तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए जुड़ा है अंधाधुंध भोग भोगने के लिए नहीं इसलिए मैं कहता हूं गृहस्थ आश्रम संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है ये देख लो प्रयोगशाला है ये लिखा है ज्ञान प्राप्ति के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको अवसर मिला है शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का एक प्रयोग करो और सार निकालो कितना सुख और कितना दुख इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन चीजों से जीवात्मा संयुक्त हुआ तस्मात संयोग संयोगा संयोगा दृश्य दृश्य उपलब्धिर उपलब्धि या या सब होगा सब होगा इस संयोग से अब जो आत्मा का शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ संयोग हुआ इस संयोग से क्या होगा दृश्य से या उपलब्धि जगत का जो ज्ञान हुआ आम मीठा है नींबू खट्टा है करेला कड़वा है नीम भी कड़वी है ये अच्छा है ये खराब है ये सुखदायक है ये दुखदायक है ये सारा ज्ञान हुआ और ये मन बुद्धि शरीर इंद्रियों के माध्यम से हुआ इनकी सहायता से हुआ तो जगत के बारे में जो हमको ये सारी जानकारी हुई इसका नाम है सब इसका नाम है भोग जो इन्फॉर्मेशन हुई जानकारी हुई इसको भोग नाम से कहेंगे ठीक है हाँ या तो या तो द्रष्टु द्रष्टु स्वरूपोपलब्धि स्वरूपोपलब्धि सो अपवर्ग सो अपवर्ग अब अपवर्ग की स्थिति क्या है कहते हैं या तो जो तो द्रष्टु दृष्टा के जीवात्मा के अपने स्वरूप की स्वरूपोपलब्धि जो अपने स्वरूप की उपलब्धि हुई जीवात्मा को अपना स्वरूप भी समझ में आ गया मैं कौन हूं आज बड़े बड़े वैज्ञानिक को ये नहीं पता मैं कौन <laughs> वो बेचारा एटम को जानता है इलेक्ट्रॉन को जानता है एनर्जी को जानता है सूर्य को जानता है सौरमंडल को जानता है गैलेक्सी को जानता है माइक्रो वर्ल्ड से मैक्रो वर्ल्ड तक सब कुछ जानता है पर वो खुद को नहीं जानता मैं कौन है ना आश्चर्य की बात <laughs> दुनिया भर को जानता अगर खुद को नहीं जानता मैं कौन तो इस योगाभ्यास से अध्यात्म विद्या से व्यक्ति खुद को जान लेता है मैं कौन हूं मैं शरीर नहीं हूं मैं इंद्रिय नहीं हूं मैं बुद्धि नहीं हूं मैं मन भी नहीं हूं मैं अहंकार भी नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं और मैं आत्मा कैसा हूं अणु आत्मा इतना छोटा इतना छोटा उसकी कल्पना करना भी कठिन एक मच्छर का साइज कितना बड़ा है मच्छर का शरीर इसमें इसमें एक करोड़ आत्माएं घुस सकती इतना छोटा है तो एक मच्छर में एक करोड़ आत्माएं घुस सकती आप सोचिए एक आत्मा का साइज कितना छोटा होगा इतना छोटा है इस अध्यात्म विद्या से उसको पता चलता है मैं कैसा हूं परंतु व्यक्ति अविद्या के कारण इस साढ़े पांच फीट के शरीर को मैं समझता है ये सब अविद्या है परंतु इन्हीं साधनों से शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से और विद्या प्राप्ति से उसको अपना स्वरूप पता चल जाता है मैं कौन हूं तो जब उसको अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है मतलब जानकारी होती है मैं तो अणुमात्र हूं इतना छोटा सा हूं कर्म करने में स्वतंत्र हूं फल भोगने में परतंत्र हूं और ये खीर पूरी हलवा मिठाई जो मैं खाता हूं मुझे तो मिलता नहीं इस बात पर ध्यान दीजिए जो यहाँ खास कंसंट्रेट करने की बात है वो ये है जो अपने स्वरूप की जो जानकारी है वो ये है चिति शक्ति परिणाम परिणामी परिणाम जीवात्मा अपरिणामी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है घटना बढ़ना जुड़ना कटना गलना सड़ना कुछ नहीं होता है हमेशा एक सा रहता है कांस्टेंट कोई चीज उसमें मिक्स नहीं होती जैसे दूध में चीनी घुल जाती है गुड़ घुल जाता है ना शक्कर डालो घुल जाती दूध में आत्मा में कोई चीज घुलती मिलती नहीं है मिक्स नहीं होती ये आत्मा का असली स्वरूप ये उसको समझ में आ जाता है जब ये समझ में आता है कि मिठाई खाओ तो भी मेरे अंदर नहीं गई हलवा खाओ तो भी नहीं गया राजमा खाओ तो भी नहीं गया पुलाव खाओ तो भी नहीं गया कुछ भी मेरे अंदर नहीं जाता फिर एक करोड़ कमाओ या सौ करोड़ कमाओ एक रुपया एक पैसा भी मेरे अंदर नहीं जाता फिर एक मकान रखो या पचास मकान रखो वो भी मेरे अंदर नहीं जाता तो पागलपन है इसके पीछे भागना क्यों इसके पीछे सारा टाइम बर्बाद कर रहे ये उसको समझ में आ जाता है जब मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं मैं तो आत्मा हूं आत्मा में तो कुछ मिलता नहीं मिक्स होता नहीं तो इन चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद क्यों करो इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करो ये उसको समझ में आता है परिणाम इससे वैराग्य होना शुरू हो जाता है कहता नहीं कमाऊंगा पैसे नहीं खरीद नहीं खरीदूंगा बंगले न ये खाने पीने का सुख लेना कोई ठीक नहीं है ये अच्छा नहीं है इस तरह से उसको विरक्ति हो जाती है बस ये विरक्ति होती जाती है होती जाती है और बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल पूरा विरक्त हो जाता है इसका नाम अपवर्ग है मतलब इस स्टेज का नाम अपवर्ग है जब उसको संसार में रागद्वेष नहीं रहता और ये कब होता है जब उसको अपने स्वरूप की जानकारी ठीक हो तो ये स्थिति ऐसे आएगी हम्म? ये पहली सीढ़ी है हाँ। ये स्थिति उसको फिर आगे मोक्ष की तरफ ले जाएगी तो ये जो अनुभूति होती है इसका साधन है ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिया जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम ये स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे ये अनुभव नहीं कर पाएंगे ये नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूं अर्थात अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए भी शरीर आदि पदार्थ आवश्यक है पर यह तभी तक आवश्यक है जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध ठीक ठीक ना हो जाए और जब इन साधनों से अपना ज्ञान ठीक ठीक हो जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा फिर तो अपना मोक्ष में जाएंगे फिर यहां पैसे नहीं कमाएंगे ठीक है हाँ ये अपवर्ग की स्थिति आगे बढ़ते हैं दर्शन दर्शन कार्य कार्य अवसान अवसान संयोग संयोग दर्शन दर्शनम दर्शनम कारण कारण कारणम उत्तम जब ये दर्शन हो जाएगा दर्शन शुद्ध ज्ञान तत्व ज्ञान दर्शनम ज्ञानम को कहते हैं जब हमें ये शुद्ध ज्ञान हो गया कि प्रकृति तो दुखदायक है गली सड़ी है कूड़ा कचरा पेटी है इसमें तो बहुत दुर्गंध है मल है ये है कड़क कूड़ा है सब बेकार है और दुखदायक है और नशा पैदा करती है पागल बना देती है ये तो बेकार है छोड़ो इसे और मैं शुद्ध आत्मा हूं मुझे इससे कुछ मिलता नहीं ये उसको तत्व ज्ञान हो गया जब उसको ये तत्व ज्ञान हो जाता है तो दर्शन कार्य हो जाने पर अवसान सही होगा तब इसका संयोग खत्म हो जाता है फिर इसका अगला जन्म नहीं होगा बस यही जानने के लिए तो आए थे शरीर में यही तो जानना था कि संसार उपयोगी है या नहीं है और वो समझ में आ गया ये तो बेकार है तो फिर उसके बाद इसका संयोग खत्म हो जाता है अगला जन्म नहीं होगा शरीर मन इंद्रिया बुद्धि सब उससे जीवात्मा से अलग हो जाएंगे इसलिए इसलिए दर्शनम योग से कारणम उत्तम इसलिए तत्व ज्ञान को वियोग का कारण बताया शरीर और आत्मा के वियोग का कारण अर्थात मोक्ष का कारण शरीर और आत्मा का बार बार जन्म बंद हो जाएगा अर्थात वियोग हो गया बस इस वियोग का कारण ये है तत्व ज्ञान इसलिए इसको तत्व ज्ञान को मोक्ष का उपाय बताया आगे पढ़िए दर्शनम दर्शनम अदर्शन से प्रतिद्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी अदर्शनम अदर्शनम संयोग निमित्तम संयोग निमित्तम उक्तम उक्तम तो जैसे तत्व ज्ञान को मोक्ष का उपाय बताया तत्व ज्ञान होने पर जीवात्मा मोक्ष में चला जाएगा अगला जन्म नहीं लेगा तो तत्व ज्ञान मोक्ष का उपाय हुआ अब जो मिथ्या ज्ञान है अदर्शन वो इसका प्रतिद्वंद्वी उसका विरोधी है तो मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान का विरोधी है तत्व ज्ञान मोक्ष का कारण है तो मिथ्या ज्ञान बंधन का कारण ऑटोमेटिक उल्टा कर ये बंधन का कारण हो गया इस प्रकार से प्रतिद्वंद्वी होने के कारण इसको संयोग निमित्तम ये जन्म मरण का कारण कहा गया है अदर्शनम को मिथ्या ज्ञान को आगे इसकी और थोड़ी स्पष्टता करते हैं न अत्र न अत्र दर्शनम दर्शनम मोक्ष कारणम मोक्ष कारणम अदर्शन अदर्शन अभावात अभावात एव एव बंध अभाव बंध अभाव समोक्ष समोक्ष कहीं कहीं जब कोई चर्चा की जाती है तो किसी कार्य का सीधा सीधा कारण बताया जाता है कहीं कहीं परोक्ष रूप में कारण बताया जाता है इनडायरेक्ट कहीं डायरेक्ट कारण बताते हैं कहीं इनडायरेक्ट कारण बताते हैं तत्व ज्ञान को मोक्ष का कारण बताया ये इनडायरेक्ट कारण है परोक्ष रूप में सीधा सीधा नहीं तो सीधा सीधा क्या कारण है उसको यहां इस पंक्ति में खोला है तो कहते हैं न अत्र दर्शनम मोक्ष कारण यहां पर इस संदर्भ में यह समझना चाहिए जो तत्व ज्ञान है वो सीधा सीधा मोक्ष का कारण नहीं है डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है परोक्ष रूप से तो फिर परोक्ष रूप में क्या स्थिति है उसकी सच्ची बात यह है वास्तविकता यह है कि अदर्शन अभावाद एवं बंध अभाव तत्व ज्ञान क्या करता है मिथ्या ज्ञान को मारता मिथ्या ज्ञान को तत्व ज्ञान मारता है क्योंकि उसका दुश्मन है विरोधी है तो विरोधी एक दूसरे को मारते हैं संसार में नियम गर्मी लगती है तो ठंडक लाओ ठंडक लगती है तो गर्मी लाओ एक दूसरे के विरोधी हैं एक दूसरे को मारते हैं तो वास्तव में क्या होता है तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का अभाव होता है और मिथ्या ज्ञान के अभाव से बंधन का अभाव होता है अब बंधन नहीं हुआ इसी का नाम मोक्ष है तो मोक्ष का सीधा कारण हुआ मिथ्या ज्ञान का अभाव अब मिथ्या ज्ञान का अभाव हुआ तत्व ज्ञान से तो ये दूर का कारण इसलिए इसको इनडायरेक्ट कारण मानना चाहिए पर मोटी भाषा में कभी कभी सीधा भी कह देते हैं कह देते हैं बाकी होता नहीं उसमें क्रम ये रहता है जैसे लौकिक उदाहरण देंगे तो इस तरह से दे सकते हैं कार जो है वो पेट्रोल से चलती है जैसे हम मोटी भाषा में कह देते हैं कार जो है पेट्रोल से चलती है वास्तव में पेट्रोल से नहीं चलती है पेट्रोल के जलने से एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी से कार चलती है तो पेट्रोल से चलती है ये मोटी भाषा है इनडायरेक्ट हम्म। दूर का कारण है सीधा कारण है पेट्रोल के जलने से जो शक्ति पैदा होती है उस शक्ति से कार चलती है तो इसी तरह से तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है ये तो मोटी बात है बीच की बात यह है कि तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है और मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से मोक्ष होता है तो अगला जन्म नहीं होता है अगला जन्म ना होना यही तो मोक्ष है इस प्रकार से ये जानना चाहिए दर्शन दर्शन भावे भावे बंद कारण से बंद कारण से अदर्शन से अदर्शन से नाश इत्यतो दर्शनम दर्शन ज्ञानम ज्ञानम कैवल्य कैवल्य कारणम कारणम उक्तम उक्तम तो उसी को खोल के समझा दिया कि दर्शन से भाव तत्व ज्ञान के होने पर बंद कारण से अदर्शन से नाशा बंधन का जो कारण था अविद्या अदर्शन उसका नाश हो जाता सही स्थिति ये इत्यतो इसलिए दर्शन ज्ञानम जो तत्व ज्ञान है उसको कैवल्य कारण उत्तम उसको मोक्ष का कारण कह दिया जैसे कार से पेट्रोल चलती है पेट्रोल से कार चलती है इस तरह से तो ये तो इसकी व्याख्या हो गई सूत्र की अब वो आठ पक्ष उठाएंगे कि ये जो मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है अदर्शनम तत्व ज्ञान से वो मिथ्या ज्ञान क्या है जिसके नष्ट होने पर मोक्ष हो जाता है वो मिथ्या ज्ञान क्या है उसके स्वरूप को अलग अलग तरह से लोग समझते हैं जैसे आपने कहा ना अभी कि आर्य समाज वाले तो ये कहते हैं कि संन्यास लेना पड़ेगा मोक्ष के लिए इनका विचार तो ऐसा है अन्य संप्रदाय वालों का ऐसा है कि गृहस्थ से भी मोक्ष हो सकता है तो जैसे मोक्ष के बारे में लोगों की अलग अलग विचारधारा है कि ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है ऐसे ही मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में या उसके संबंध में भी लोगों के विचार अलग अलग है कोई किसी चीज को मिथ्या ज्ञान समझ रहा है अदर्शन कोई किसी चीज को अदर्शन समझ रहा है तो यहां आठ प्रकार के पक्ष रखे गए आठ तरह के विचार तो इसमें से बताएंगे एक ठीक होगा बाकी सारे गलत सत्य तो एक ही होता है पांच अठे चालीस चालीस सही उत्तर तो एक ही है हम्म। अब बाकी सारे गलत है आप कितने गलत उत्तर तो आप असंख्य बना दो पांच अट्ठे तैतीस पांच अट्ठे सैंतीस पांच अट्ठे इकतालीस पांच अट्ठे चवालीस सारे आंसर गलत है सही उत्तर तो एक ही है तो मोक्ष का रास्ता भी एक ही है और वो मिथ्या ज्ञान भी एक ही है उसके निवारण का उपाय तत्व ज्ञान भी एक ही है सही उत्तर केवल एक है बाकी सब कितने भी पक्ष हों वो हरेक का अपना अपना चिंता है वो गलत हो सकते हैं तो यहाँ आठ पक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे भूमिका में कहते हैं किंच इदम किंच इदम दर्शनम दर्शनम नाम नाम तो एक तरह से पक्षों की भूमिका के लिए कह दिया कि भाई ये दर्शन अदर्शनम नाम वस्तु क्या है दर्शनम नामक चीज क्या है इसको थोड़ा समझाओ अभी आठ पक्ष रखते हैं पहला किम किम गुणानाम गुणानाम अधिकार अधिकार तो आठ दस हो रहे हैं विराम दे इसको बाकी फिर हाँ, पढ़ फिर बाद में पढ़ेंगे ये आठ पक्ष में थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी हाँ। तो अभी थक गए होंगे इसके यहाँ विराम देते हैं अच्छा। हाँ एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से ओ सबको सादर नमस्ते जी बोलिए सबको सादर नमस्ते जी